ऐश की जगह बनाया अल्लाहसा अल्लासल आखिरा दुनिया ये मेहनत की जगह है कि मेहनत के जरिए जिम्मेदारियों को पूरा करना जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये मेहनत की जा है तमाशा नहीं हर एक को अल्लाह पाक ने दुनिया में मेहनत के लिए भेजा ये मेहनत की जगह ही है ये आराम की जगह नहीं है ख्वाहिशा पूरा करने की जगह नहीं है उम्मीदें पूरा करने की जगह नहीं है ये जगह मेहनत की है इसलिए कि दुनिया वक्ती है थोड़ी है छोड़नी है हर एक इंसान दुनिया में आया है जाने के लिए किसी को ठहरना नहीं बचपन गया जवानी गई बुढ़ापा आया फिर यहां से चला अमीर हो गरीब हो बादशाह हो पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो कि हर एक को दुनिया से जाना है से दुनिया पक्ति है थोड़ी है छोड़नी है लेकिन दुनिया ये रंग रंग रंग रंगियों की जगह है मुजयन की गई है जुगिन अली नास शहबाद शहबात मिनसा बल बनीन बल अनातिर मुकदरती मिन जहब बल फिजत बलती बल मुसम्मती बल अनहामी बल हक ये सारी जो जगह है ये सब फंसने की है इसलिए इसको दुनिया को दुनिया समझना कि ये जगह छोड़नी है जाना है मुझे ये दुनिया हमें धोखे में न डाले कि दुनिया के मुकाबले में आखिरत है और आखिरत की तैयारी यहाँ है और आखिरत दुनिया के मुकाबले में दाइमी है हमेशा है वही नदार आखिरत नहियल हैवान लव कानू आलम और हम क्या है कि इसी में उलझे हुए वह आखिरत गाफिलून और हम उसको भूले हुए हैं और इसको असल समझे हुए हैं कि सब कुछ यही है इसलिए अल्लाह तबारक वाताला में समझा रहे हैं कि वो मेरे प्यारो देखो तुम्हारा बचपन खेल कूद में गया मेहनत की जगह है ये जगह जो है वो मेहनत की है कि मेहनत के जरिए जिम्मेदारियों को पूरा करना कि बचपन खेल कूद में चला गया वह अलम अन्नमल हयाती दुनिया लड़ीबू वह या बचपन आपका खेल कूद में चला गया या फिर बचपन गया फिर जवानी आई जवानी दीवानी शहवानी मस्तानी लेकिन जवानी ठहरने की नहीं है जाने की है बालमो अन्नमल हयात दुनिया लड़बू वलह वजीनतुन व तफाखुरुम जवानी आई और जवानी कंपटीशन में चली गई फतका धुरुम बिल अम्बाली बल अवलाद या फिर जवानी ढली जवानी जवानी आज नहीं तो काले जवानी जाने की ठहरने की नहीं है या फिर क्या आया कि तीसरा स्टेशन बुढ़ापा है कि बुढ़ापे में उम्मीदें लंबी हो गई हाजी साहब कि भाई फुला काम हो जावे फिर चार महीने लगाएंगे फिर आखिरत बनाएंगे तो फुलानी चीज हो जाए बच्चे के लिए दुकान हो जावे बच्चे के लिए मकान हो जावे वो पुला जगह दुकान लिए दुकान जो है वो चलने लगे फिर जिंदगी आखिरत के लिए तो अल्लाह पा कहते हैं कि धोखा है कि बचपन खेलकूद में चला गया जवानी कंपटीशन में चली गई और बुढ़ापा उम्मीदों में चला गया कमत नहीं गई लबक समझाते हैं बड़े प्यारे अंदाज से कि देखो तुम्हारी मिसाल कि किसान आदमी खेडूत आदमी जब पानी बरसता है आसमान से पानी बरसता है बारिश होती है तो बहुत खुश होता है कि खेती होगी बीज फटा और खेती गई अजबल कुफार नबातु तुम ये बचपन तुम्हारा आया और क्या हुआ बचपन में कि जब तुम पैदा हुए तो लोग बहुत खुशियां मना रहे थे लोग खुश थे लोग मुबारकबाद दे रहे थे लोग मिठाई तकसीम कर रहे थे और तुम रो रहे थे अरे ऐसा होता है कि नहीं होता बोलो ना भाई बच्चा पैदा होता है तो हंसते हुए पैदा होता है कहीं हंसते हुए पैदा हुआ कि नहीं बच्चा तो रोते हुए ही पैदा होता है लोग हंसते हैं लोग क्या करते हाँ, भाई वो काका बनी गए वो नाना बनी गए वो मामा बनी गए मुबारकबाद दी जाती है कमसरी गई साज बल गुफारा या फिर बचपन तुम्हारा गया खेलकूद में चला गया या फिर जवानी आई जवानी ये जवानी हुक्म को पूरा करने में थी जिम्मेदारियों के पूरा करने में थी अल्लाह के अहकाम को पूरा करने में थी नबी अली सलाम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की थी और दुनिया के सात सौ करोड़ इंसान है एक एक इंसान अपनी आखिरत बनाने के अंदर लगे इसकी मेहनत और कोशिश थी लेकिन जवानी गफलत में गुजर गई हाँ ये जवानी ऐसे ही गुजर गई ख्वाहिशात में नफसानियत में और वही चीजों में वही शक्लों में वही रंगरलियों में आदमी फंस गया और जवानी वो तो जाने की है कि जवानी आ गई कि जवानी गई कि बुढ़ापा गया कि बुढ़ापे में भी क्या बस अल्लाह तबारक ना चूंकि बंदों के लिए करीब है रहीम है इसलिए हमेशा शबकत का मामला करता है आदमी भूल भलैया में होता है तो अल्लाह पर याद दहानी करवाते हैं बेदार करते हैं चौकन्ना करते हैं मेरे बंदे जाग मेरे नंदे देख आदमी दुआ पड़ता है ना उठता है तो दुआ पड़ता है अलहमदुल्ला बादमा बाद पहले ही नसूर अल्लाह कहते क्या मेरे बंदे दिन मैंने तुझे दिया ये दिन ये घड़ी ये वक्त ये जान ये माल कीमती है आखिरत बनाने के लिए है जिम्मेदारी पूरी कर मेहनत कर मेहनत के जरिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर अहियाना देख मैंने जिंदा किया आंखों ने देखना बंद कर दिया था जबान ने बोलना बंद कर दिया था कान ने सुनना बंद कर दिया था हाथ ने पकड़ना बंद कर दिया था पैर ने चलना बंद कर दिया था गोया कि आदमी चला गया अल्लाह को कहता अहियाना तुम मर गए थे मैंने जिंदा किया नींद मौत की बहन है आदमी सब भूल जाता है सारी चीजें खत्म सब सोया हुआ है अल्लाह को कहता अहियाना मैंने जिंदा किया बादमा अमातना तुम चले गए थे और फिर आगे याद दिला रहे वही लेन नशूर हमारी तरफ आना है कि जागो एक अफलत में धोखे में न चला जा रही हाँ तो अल्लाह पाक बंदे के साथ शफकत का मामला करते हैं याददानी करवाते हैं मेरे बंदे है मरा बंदे हर एक के लिए शफकत का मामला है जवान के लिए भी ये जवानी है ये जवानी तू तो लगा दे थोड़ी सी लगा दे कि तेरा सद्दा मुझे बहुत पसंद तेरी इबादत मुझे बहुत पसंद तेरी फिक्र तेरी मेहनत मुझे बहुत पसंद <coughs> बूढ़े हो गए पचास साल की उम्र हो गई कि पचास साल की उम्र हो गई है लगभग रुझु होने की तोफीक दे देते साठ साल की उम्र हो गई हिसाब किताब में तफरीफ कर देते सत्तर साल की उम्र हो गई आसमानी मखलूक मोहब्बत करती है अस्सी साल की उम्र हो गई नेकियां लिखते हैं अल्लाह पक ये उम्मीदों से निकले लंबी लंबी उम्मीदों से निकले हाँ, इसलिए ये इज्तिमा जो है ये आपको यहाँ बुलाकर एक हकीकत समझाई जा रही है कोई किस्सा कहानी नहीं है मैं भी मोहताज आप भी मोहताज हम सब एक प्लेटफॉर्म पर है और ये बात हम सबको समझाई जा रही है पूरे मजमे को और दुनिया में बसने वाले एक एक इंसान को कि भाई जिंदगी कीमती है जिंदगी मेहनत के लिए है जिंदगी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए है ऐसे ही गुजरने के लिए नहीं है ये बात यहां समझाई जा रही है ताकि इस धोखे में समझे निकले क्यों कि अल्लाह पाक ने हर एक के साथ मौत लगाई है और मौत अचानक है इधर जा अजलून ला तकदीमून वक्त आने पर नए सेकंड पीछे नए सेकंड आगे वक्त तय है और हरेक को आनी है बच्चा हो जवान हो बूढ़ा हो हरेक को आनी है मौत आनी है अल्लाह का फैसला अटल है कुल्लू नफसिन दाइकतुल मऊत हर जानदार को मौत का मदद करना है कोई नहीं रहेगा यहां मौत बरहक है कफन में शक है कफन मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं लेकिन मौत ये कहीं भी रहो किसी भी हाल में रहो आई नमा तकून युद्रिक कुमल मऊत आई नमा तकून युद्रिक कुमल मऊत वनो कौन तुम भी बुरूज मुसैदा तो चुने किले में पैक कर दो कहीं भी चले जाओ या परिंदा की हवारी जाती लेकिन मौत तुम्हें पकड़ लेगी हाँ अल्लाह पाक कह रहे हैं कि देखो तुम बाहर नहीं निकल सकते या माचल जिन वल इन इन तुम अंतन फुदू मिन अख्तार इस्लामाबादी बल फन फुजू कि वो इंसानों की जमात और वो जिन्नातों की जमात कि अगर तुम निकल सकते हो हमारे आसमान और जमीन से तो निकलो पांच बुजू अल्लाह पाक समझाते देखो नहीं कर सकते नहीं निकल सकते यही रहना है और मौत तुम्हें पकड़ लेगी अचानक बच्चा जाता है जवान को कहता है वो जवान वो जवान धोखे में मत रहे मैं बचपन में चला गया अरे जाते कि नहीं बच्चे एक जवान जाता है हट्टा कट्टा तंदुरस्त नखमा रोग नदी कि अचानक कुर्सी पे बैठे बैठे नीचे गिर गया 25 साल 26 साल 27 साल 18 साल ओ अचानक हाँ जवान कह रहा है ओ बड़े मिया ओ बड़े मियाँ धोखे में मत रहना मेरी दाढ़ी काली थी सफेद नहीं हुई और मैं चला तब अल्लाह का पहला फैसला है हर जानदार को मौत का मजाक करना है कुल्लू नफ्सिल मौत ये कोई या नहीं रहेगा और फिर दूसरा फैसला अल्लाह पक्का ये है कि अकेले जाना है ये जो रंगरा लिया जो दिख रहे हैं ना कि मारो मकान मारी गाड़ी मारो बंगलो मेरी चीजें मेरी ये तुम्हारा कुछ नहीं है सब टेम्परवारी है मालिक वही है उसने दिया है टेम्परवारी उसी का है वही खालिक वही मालिक उसी का असर उसने भक्ति तौर पर दिया है और जिस वक्त चाहेगा जब चाहेगा ले लेगा वो बुला लेगा तो कोई चीज साथ नहीं आएगी तने तनहा जाना है अकेले जाना है और तीसरा फैसला तैयारी साथ में चलेगी अमल साथ में चलेंगे अच्छे हो बुरे हो जो तैयारी किए जो किया है अच्छे अमल किए हैं वो भी साथ में है और बुरे अमल है वो भी साथ में है तो ये हर एक के साथ जाने के हैं फिर हिसाब किताबें आगे अगर हशर वहां से आखिर शुरू हो जाएगी अबर हशर नशर फुलसिरात मिजान फिर आखिरी मंजिल जन्नत जहन्नम ये हर एक के साथ में होने का है इसलिए जब पैदा हुए ना तो शाहिद कह रहा था कि वो मियाँ जब तुम दुनिया में आए तो तुम तो रो रहे थे और लोग हंस रहे थे तुम आए तो तुम तो रो रहे थे और लोग हंस रहे थे आगे वो कह रहा है ऐसी करनी करियो <clears throat> यानी दुनिया मेहनत की जगह है गुजारने की जगह नहीं है वक्त थोड़ा है और दुनिया वक्ती है वक्त कीमती है जान मान अल्लाह ने दी है ये जिम्मेदारी पूरा करने के लिए दी है कि मेहनत करना ऐसी करनी करियो कि जब जाने का वक्त आए कि वक्त आएगा वक्त आना है बच्चे का जवान का बूढ़े का हरे का वक्त आना है कि जब जाने का वक्त हो तो ऐसी तैयारी हो लोग रोएंगे लोग रोएंगे और तुम हंसते हुए जाना तो तैयारी की है कि तैयारी करके जा रहा है आखिरत सामने है और आखिरत को सामने रखकर वो तैयारी उसने की है कि दुनिया में मेहनत की है और मेहनत के जरिए जिम्मेदारियों को पूरा किया है अल्लाह के अहमाकात को नबी अलीसलाम के तरीके को अपनी इबादत अपनी माशरत अपने मामला अपने अखला और फिर जिम्मेदारी को इसने पूरा किया है तो फिर जाने का वक्त आएगा तो लोग तो रोने के हैं बेटा गया बाप गया भाई गया माँ गई ओ हो एक माता में लेकिन शायद क्या कह रहा है क्या क्या तैयारी की है तो हंसते हुए तुम जाना ये तैयारी करना ताकि जाने के वक्त पे तुम हंसते हुए जाना और तुम्हें कहा जाए ऐसी मौत तुम्हारी आए कि तुम तुम्हें देखकर जमीन भी राजी हो जाए तुम्हें देखकर अल्लाह भी खुश हो जाए हाँ अल्लाह की रजा तुम्हें नसीब हो जाए ऐसी मौत और फिर आगे कह रहा है सद अफसोस सद अफसोस सद अफसोस कि आए थे रोते हुए और जा रहे हो रोते हुए कोई प्रोग्राम नहीं है आखिरत का सारे प्रोग्राम यही है कि उसी में उलझे हुए हैं कि वहां का कोई प्रोग्राम नहीं कि वहां कोई तैयारी नहीं हाँ इसलिए ये बात मुझे आपको समझाई जा रही है कि वक्त बहुत कीमती है कि दुनिया मेहनत की जगह है ऐस की जगह नहीं है ख्वाहिशात पूरा करने की जगह नहीं कि मनमानी जैसा चाहो जैसा करो यानी ख्वाहिशात पूरा होने की जगह तो जन्नत है अल्लाह लाइशा लाइशा रहा है अल्लाह देंगे वहां पे ऐसा देंगे ना आंखों ने देखा न कानों ने सुना वलकुम फी मा तस्तही अनफुसुकुम वलकुम फी मा तदउन जो जी में आएगा वो मिलेगा वहां मिलेगा या नहीं या तो ये तो मेहनत की जगह है और आराम आराम या नहीं आराम कबर में है नम नम मतलब अरूस सोने की जगह कबर है बदले की जगह ऐश की जगह जन्नत है दुनिया मेहनत की जगह है अल्लाह पक ने यहाँ मेहनत के लिए भेजा है इसलिए मुझे और आपको एक मेहनत करनी है कि मेहनत के जरिए जिम्मेदारियों को पूरा करना इसलिए नीयत बनाए हम सब इस वक्त सुन रहे कि अल्लाह हमें भी कुछ तोफीक दे कि हम मेहनत करें और मेहनत करिए हमारी जो जिम्मेदारी है तूने जो जिम्मेदारी हमको दी है वो जिम्मेदारी को हमको पूरी करें वो पूरी करें कि क्या जिम्मेदारी है हर इंसान पर तीन जिम्मेदारी है हर एक पर जवान पर बूढ़े पर अमीर पर गरीब पर शहरी पर देहाती पर अरब पर आजम पर जा जो जो रहता है कि हरेक पर तीन जिम्मेदारी इस पहली पहली जिम्मेदारी क्या है कि पहली जिम्मेदारी एक के लिए या यूहल्लदीन अन खुशकूम ये सबसे पहली जिम्मेदारी है कि अपने आप को जहन्नम से बचाना ये पहली जिम्मेदारी हर एक के लिए कि क्या मेहनत करनी है या पहली मेहनत अपने पे करनी है अपने पे आदमी मेहनत करे और मेहनत के जरिए जो है वो अपने आप को जहन्नम से बचाए ये दो चीजें हैं ठिकाने दो है एक जहन्नम है एक जन्नत है हाँ। तो मेहनत क्या करनी है कि जहन्नम से बचाना है कि जो जहन्नम से बचा वो कहा जाएगा पमन कि जिसने अपने आप को जहन्नम से बचाया और अपना दाखला जन्नत में करवा लिया तो वो तो कामयाब ये है कामयाबी ऐसा पहली मेहनत तो अपने आप को जहनम से बचाना कि हर आदमी अपने आप को जहनम से बचाएगा कि जहनम से बचने के लिए क्या करना है कि जहनम से बचने के लिए आदमी दुनिया में कि अपनी जिंदगी के अंदर दीन लाए अपनी जिंदगी के अंदर क्या लाए दीन जहनम से बचने के लिए हाँ दीन लाना है ये काम है और दीन आसान है अब दीनू यूसुल बहुत आसान है कि हर आदमी हर आदमी दीन पे चल सकता है हर आदमी मशगूल से मशगूल आदमी भी चल सकता है लंगड़ा आदमी भी सकता, चल सकता है लूला आदमी भी सकता, चल सकता है अंधा भी चल सकता है इसलिए क्या आसान है ये बहुत आसान है कि दिन कोई चीज नहीं था कि सब करो कि सारी चीजें करनी है करो लेकिन उसमें दिन को दाखिल करो क्या करो उसमें कि खाना खा रहे हो कि खाने में अल्लाह का हुक्म को कि दीन क्या दो चीजें दीन किसको कहते हैं कि दो चीजों को कहते हैं अल्लाह के अहकाम नबी अलीसलाम के तरीके ये कितना आसान है कि जो काम कर रहे हो कि खाना खा रहे हो तो देखो अल्लाह का हुक्म क्या है और नबी का तरीका क्या है ये भाई दो चीजें हो गई कि ये खाना कि खाने से पेट भरा खाने से जन्नत बन गई ये दीन है ये दीन आएगा तो इतना आसान ये जो काम कर रहे हैं पानी पी रहे हो कि पानी उसमें अल्लाह का हुक्म क्या है नबी का तरीका क्या है लिबास पहन रहे हो कि अल्लाह का हुक्म क्या है नबी का तरीका क्या है शादी है अल्लाह का हुक्म क्या है नबी का क्या है माशरत है मामलात है कि अल्लाह का हुक्म क्या है नबी का तरीका क्या है ये इसको अपने अंदर लाना बहुत आसान है हर आदमी इसको कर सकता है कि मालदार के भाई मालदार है कि मालदार को माल छोड़ने की जरूरत नहीं है जो अहदेदार है अहदेदार को अहदा छोड़ने की जरूरत नहीं है कि भाई डिग्री वाला है कि डिग्री छोड़ने की जरूरत नहीं है कि मलंग बनने की जरूरत नहीं है रोबानियत इख्तियार करने की जरूरत नहीं है बीवी बच्चों को छोड़ना नहीं है ये दीन आसान है कि मालदार मालदारी में अहदेदार अहदेदारी में डिग्री वाला डिग्री में हुकूमत वाला अपनी हुकूमत में जवान अपनी जवानी में कि मुलाजिम अपनी मुलाजमत में कि हर एक को जो शोभा दिया है जो शोभा मिला है कि आदमी उसमें क्या करे दीन को दाखिल करे तो दो काम करने हैं पहली बात तो ये समझनी कि दीन बहुत आसान है दीन क्या है आसान है कि दीन बहुत आसान हर आदमी दिन पे चल सकता है इसलिए कि आसान है दीन यूसर कि हर एक आदमी दिन पे चल सकता है अब अल्लाह ताला ने हर एक को एक शोभा दिया है हर एक को अल्लाह पक ने दिया है अल्लाह की तकसीम है ना कसम ना हयाती दुनिया कि दुनिया की जिंदगी में हमने हर एक को दिया है किसी को मुलाजिम बनाया है किसी को सेठ बनाया है किसी को नौकर बनाया है किसी को माल दिया है हर एक को दिया है अल्लाह पाक ने ये किसने दिया है अरे बोलो ना भाई अल्लाह ने हमारा कोई कमाल नहीं है मालदार का कोई कमाल नहीं है और गरीब का कोई ऐसा नहीं कि उसकी किस्मत फूटी हुई थी इसलिए वो गरीब नहीं जो मिला है अल्लाह की तरफ से मिला है नानु कसम अल्लाह पाक हमने तकसीम किया है अल्लाह ने दिया है अब हमारे जिम्मे दो चीजें हैं नंबर एक कि जो चीज मिली है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें अल्हम्दुलिल्लाह जो हाल तूने दिया वो हाल सबसे अच्छा जो हाल तूने दिया वो हाल हाँ निन्यानवे निन्यानवे के चक्कर में नहीं पड़ने का हाँ ये शुक्र करने का कि जो हाल और शुगर करने के लिए कि दुनिया के मामले में अपने से नीचे को देखो कि शुगर की तोफी होगी कि आदमी अपने से नीचे वालों को देखो कि भाई मेरे पास में वो अपना मकान है कि भाई ये आदमी को किराए का मकान है अल्लाह तेरा शुक्र है किराए का मकान है अपना जाति का मकान है हवेली को नहीं देखना अपना मकान देखना है कि अल्लाह पाक तूने एक बेडरूम दिया है हॉल दिया है किचन दिया है मेरा शुक्र है हाँ ओहो बहुत सारे लोग बेचारे जाति मकान नहीं है किराए पे रहते हैं हाँ और किराए वाला वो फुटपाथ वालों को देखेगा और फुटपाथ वाला खाना बदोश को देखेगा कि देखो चल फिर रहा है कोई कोई नहीं है हाँ कि अपने हिस्से वालों को देखे शेख रामचुल्ला रमतुल्ला कहते तो तेज गर्मी थी मैं गर्मी के अंदर जो है वो मस्जिद मुझे जाना था मेरे पास पहनने के चप्पल नहीं थे तो मैं जब घर से निकला तो मेरा पैर जलने लगे और जब मस्जिद में मैं दाखिल हुआ तो मुझे ना शुक्री की टॉपिक हुई कि शादी कैसा आदमी है तेरे पास पहनने के चप्पल भी नहीं है उसे काजी अहमदुल्ला तो ने कहते हैं कि अचानक मेरी नजर पड़ी ऐसे आदमी पे जिसके दोनों पैर नहीं थे तो मैंने उसको देखा तो मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है चप्पल नहीं है पैर तो है ये चप्पल नहीं है हाँ कि अपने से निचले वाले को देखने कि आदमी अपने तो शुक्र की कॉफी को और शुक्र आदमी को हाँ कि जो पोजीशन है ना उसमें बरकतें लाएगा कि जब आदमी शुक्र करता है तो नियमत बाकी रहती है नियमत बढ़ती है उसमें बरकतें आती है अल्लाह की तरफ से तो शुक्र की तोफीक होती है तो पहला काम बदलने का नहीं उसको बस अल्लाह के फैसले पर राजी होने का अल्लाह जो तुमने दिया है बहुत हाल जो हाल तुमने दिया वो हाल सबसे अच्छा हाँ जो जो इलाका दिया वो सबसे अच्छा जो खानदान दिया वो सबसे अच्छा ये घर में जो बच्चे दिए वो सबसे अच्छे हाँ क्या हुआ कोई रखा कि नहीं अल्लाह ने दिया सबसे अच्छे बीवी के भाई तेरे मिजाज के मुताबिक अल्लाह ने तुझे दिए है हाँ लाखों में अल्लाह ने सेटिंग किया है कि तेरे मीटर के मुताबिक कौन सी अच्छी है वो अल्लाह ने सेट की है हाँ वो तुझे निभाने वाली यही है इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कर अल्लाह ने बड़ी नेमत दी कि जो मिली है बहुत अच्छा इधर उधर इधर उधर निगाह नहीं दौड़ाने की जो इलाका मिला जो नियामत ये अल्लाह ने दिए जो शोबे में रखा अल्लाह ने रखा उसमें पहला काम आदमी शुक्र करेगा अलहमदुल्ला अल्लाह तेरा शुक्र पहला काम फिर दूसरा काम कि उसमें दीन को दाखिल करें क्या दाखिल करें उसमें दीन को दाखिल करें हाँ तो फिर जैसे दीन आया बरकतें लेके आएगा रहमतें लेके आएगा आकियत लेके आएगा सुकून लेके आएगा मजे की जिंदगी लेके आएगा कौन कह रहा है क्या कुरान कह रहा है मन अमिला करीन औ उनता वह मुमिन अल्लाह पाक कहते हैं कि जिसकी जिंदगी दीन वाली ईमान अमल वाली है तो फिर हम क्या करेंगे कि उसकी जिंदगी बिजी रहे चाहे फिर वो कोई भी हो बादशाह हो और जो है वो अमीर हो जवान हो बूढ़ा हो जो भी हो तो उसकी जिंदगी में दीन है अल्लाह पा कहते हैं उसकी जिंदगी मजेदार बना देंगे फलन हयातन तयबा अल्लाह पा कह रहे हैं हम उसकी जिंदगी मजेदार मजे आएंगे उसको जिंदगी में सुकून इतमान आफियत देंगे राहत देंगे प्रॉब्लम टेंशन परेशानियां मुसीबत उसे दूर रहेगी घबराएगा नहीं अखबार की हेडिंग पढ़ के કે તેલના ભાવ વધી ગયા पेट्रोल પેટ્રોલના ભાવ વધી ગયા ઘબરાય ગયા નહીં फलन हयनो हयातन तयबा मजे की जिंदगी मिलेगी भाई अल्लाह है देंगे कोई टेंशन नहीं है कि आसमान से पानी बरसना बंद हो जाए कोई मसला नहीं है जमीन से गल्ला उगना बंद हो जाए अल्लाह अपनी उधर से पालेंगे फलन हयनो हयातन तयबा हाँ वलन अजरहम यहसनी मा कानू यहमलून फिर ओहो के जाने के बाद फिर मजे ही मजे हैं बदला तो वहां मिलेगा कि दुनिया से दस गुना बड़ी जन्नत अल्लाह पाक अता फरमाएंगे और जो इसने देखा नहीं ऐसी ऐसी चीजें देंगे ऐसी खाने की ऐसे पहनने की अल्लाह पाक कथा फरमाएंगे जो इसको में इसने न इसकी आंखों ने देखा न इसके ख्याल में इसने इसको कभी ख्याल आया हाँ ऐसी चीजें अल्लाह पाक कथा फरमाएंगे और अगर दीन नहीं है सब कुछ है सारी चीजें हैं ये सब कुछ है दुनिया में आदमी देख रहा हो भाई क्या है कि दिन नहीं है तो क्या है नहीं भाई बड़ा मसला है अभी पता नहीं चलेगा वो तो अल्लाह पाक क्या करते हैं अल्लाह पाक ढील देते हैं मोहब्बत में तो ढील से आदमी को ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे पास सब है दीन नहीं है देखो कैसे मजे है कैसे मजे की जिंदगी है गाड़ी भी है बंगला भी है इज्जत भी है मैं निकलता हूँ लोग मुझे सलाम करते हैं मैं जाता हूँ लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई मेरी जिंदगी में दिन नहीं नमाज नहीं रोजा नहीं जक़ात नहीं हज नहीं कि दिन नहीं मेरी जिंदगी में हाँ लेकिन भाई धोखा है क्या है धोखा है हाँ अल्लाह कहते हैं फलम्मा नसूमा दुरूबी पता सही मियाँ जब तुम हमारी नाफरमानी करोगे यानी बिगैर दीन के जिंदगी गुजारोगे तो बाज मरतबा हम खोल देते हैं ज्यादा देते हैं पता है ना अली मब्बा सही हर चीज के दरवाजे आदमी कहता है ना जमा हाथ रखो के कीचड़ में हाथ रखो क्या है सोनू कीचड़ में हाथ डाला वहां पे भी सोना ये भाई दिन देख दिन है कि नहीं ये है कि जिंदगी में दिन है कि नहीं अगर दिन नहीं है तो ये मुसीबत है हाँ हत्ता अल्लाह पाका कहते हत्ता इधर परी बीमा ऊतू कि फिर क्या होता है कि इतना चाहिए कि जो दिया है वो इतराता है हमारी तरफ नहीं जैसे जैसे कारून ने कहा आला इनमा होती तो आला हिंदी ये तो मैंने अपनी उससे कमाया है अल्लाह ने थोड़ी दिया मुझे अच्छा अल्लाह बकते हकता इला फरहू बिमा हूं बकता अखजना हूं बकता पैदा हूं सुन अल्लाह पा कहते हैं कि फिर अचानक हम पकड़ते हैं अचानक क्या करते हैं पकड़ते हैं जब पेट में दो बच्चे होते हैं ना तो दोनों साथ में अब जो है वो एक बच्चा पूरा सिख साली में आंखें भी जबान भी कान भी हाथ भी पैर भी सब कुछ है और दूसरा अंधा है लंगड़ा है बहरा है अब दोनों साथ में खाना दोनों को मिल रहा है अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं भाई तेरे पास आंखें मेरे पास आंखें नहीं क्या फर्क पड़ता है कि तेरे पास हाथ है मेरे पास हाथ नहीं क्या फर्क पड़ता है तेरा भी काम चलता है मेरा भी काम चलता है अरे भाई जो ना अमनी पाई भी गाड़ी से हमारी पाई भी गाड़ी से अमनी पाई भी बंगलो से हमारी पाई भी बंगलो से आमनी भी दुकान से हमारी भी दुकान से हाँ लेकिन वही फलम मानुसुमादुकुरबी फसाहना अलही अब्बाबा कुल्ला सही जब चूहे चूहे घर में बढ़ जाते हैं ना तो क्या कहते हैं कि वो औरतें रोटी के अंदर घी लगाती है और घी लगा के रखती है चूहा तो क्या समझता है अरे वाह भाई वाह तो बड़ा इकरम हो रहा है मेरा हाँ तो खा तो सही फिर पता चलेगा कि क्या हो रहा है हाँ ऐसे आदमी जब भीतर आता है तो फिर अचानक जब बाहर आते हैं तो फिर पता चलता है कि अरे आंखें क्या है जबान क्या है हाथ क्या है ऐसे अचानक मौत आती है और मलकुल मौत पकड़ते हैं तो फिर आदमी एकदम हक्का बक्का रह जाता है खबर के अजाबात को देखकर एकदम घबराता है हाँ आखिरत के दिन को देखेगा एकदम अब वो अब चीखेगा चिल्लाएगा ओहो चीखेगा अपनी जिंदगी में बहुत अफसोस करेगा बहुत रोएगा बंदों से मदद करेगा खुशामद करेगा अल्लाह से कहेगा रब जरूर ए मेरा रब वापस लौटा दे वापस लौटा दे लाली आमल सालेहा दीन लाऊ हाँ दीन जिंदगी में लाऊ अल्लाह पा कहेंगे कल्ला ए मेरे बंदे मैंने तुझे बहुत अच्छा मौका दिया था और मैंने तुझे बहुत मोहलत दी मैंने और मैंने साफ साफ किया ये देख बिगैर दिन के जिंदगी के कि सबसे पहले अगर दिन नहीं होगा तो मैं मीशत को तंग कर दूंगा वो वमन आरदान जिक्री वही मीशत धन का बना शुरू हो जाऊंगी आमा और वहां तुझे अंधा उठाऊंगा क्या मैंने तुझे पहले किया कल्ला ये मेरे बंदे मैंने तुझे मौका दिया था इन कहीं मधुर हुआ अब तेरा कहना बकवास है इसलिए पहला मुतालबा हमसे ये है कि जो शोबा अल्लाह ने दिया है जो हाल दिया है उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करे और उसमें दिल को दाखिल कर ले ताकि बरकत वाली जिंदगी मिले हयातन से ये मांगे हाँ कि भाई बरकती से तो धोखे में न रहे कि भाई इतना सब है तो क्या कोई मसला नहीं नहीं भाई धोखा है हाँ हाँ क्या पैसे से सब कुछ नहीं कर सकते क्या पैसे से गद्दा खरीद सकते नींद नहीं खरीद सकते पैसे से दवा खरीद सकते शिफा नहीं खरीद सकते हाँ पैसे से तो बंगला खरीद सकते हैं राहत नहीं खरीद सकते हाँ राहत सुकून इतमान दिन में ये लगा फैसला है अटल फैसला है इसलिए हमारी सबसे बड़ी जरूरत दीन है कि दीन हमें अपनी जिंदगी के अंदर लाना है ये पहली जिम्मेदारी कि दीन क्या है कि दीन पांच चीजें हाँ या युल्लदीना मनुसुलूसिल्म का हमसे मुतालबा किया है कि पूरे दिन का ये बरकतें जो मिलेगी वो परहेज में इसलिए कि बस मतलब हम क्या समझते हैं नमाज पढ़ लेना ये दीन है भाई रोजा रख लेना ये दीन है हज का महीना आ गया हज में चला जाना हर साल हज कर लेना या उमरा पे उमरा करना एक आदमी समझता है भाई ये दीन है अच्छी बात है एक दीन का शोभा है जैसे कोई अपने को कहे इंसान आदमी तो अगर कोई कहे कि तो भाई आंखें यानी आदमी ये जबान यानी आदमी के नहीं भाई कान यानी आदमी के नहीं नहीं भाई ये तो कान है जबान है आंख है आदमी तो ये पूरे का मजमुआ है ये पूरी चीजें हैं ये आदमी है ये इंसान है ये बशर है ये पूरा है ऐसे तीन पांच चीजें हैं और अल्लाह पा कहते हैं कि पांच चीजें कि पहली मेहनत हमें करनी कि पांचों चीजें अपने अंदर आवे ये क्या पांच चीजें हैं ईमानियात इबादत माशरत मामला और अखलाक पांच चीजें हाँ नियत करो कि इंशाल्लाह पांचों चीजें लाएंगे कहो हाँ, इंशाल्लाह हाँ ये पांचों चीजें अपनी जिंदगी के अंदर लानी है इबादत की लाइन नमाज रोजा जक़ात हज फराइज वाजिबात सुन्नतें मुस्तहबात तो मुसरबत तक हमें पहुंचना है कि नवाफी में तहजीद तक हमें पहुंचना है हाँ इबादत की लाइन उसको मजबूत करना या फिर माशरत है रहन सहन है हाँ आपस के आपस में रहन सहन कैसे रहना वजाकता है लिबास है रातों को जो है वो जल्दी सोना है शादी किया है मौत मैयत है आपके बच्चों बीवी के साथ में रहना है अदबाजी अं-, जिंदगी गुजारना है सारी माशरत है कि माशरत में दीन लाना है माशरत का दीन फिर मामला है लेती देती कि मामला का दीन किसमें दीन लाना कि मामला का दीन है कि दीन इसमें इसमें चाहिए फिर लेती देती किसी का लिया आपको क्या करना है वापस लेना है हड़प नहीं करना है हाँ हाथ फेरने से माफ नहीं होगा ये तोबा करने से कि हाँ भाई फिलहाल की जमीन में ली दीजिए कि तोबा करूँ कोई तक माफ नहीं देनी पड़े हक है मामला है या फिर अखलाक है या कैसे बरतना तो बोले तो रस बोले ये दिमाग एकदम ठंडा हो सर पे बर्फ जबान पे शकर ये अखलाक है ये पांच चीजें <clears throat> पांच चीजों के मजमू का नाम दीन है इसको अल्लाह पाक कहते हैं या अमर उसमें का आपका कि हरेक से मुतालबा है ये पांचों चीजों का ये पूरा दीन लाना है और फिर मेहनत करके इस दीन के अंदर हकीकत पैदा करना है ताकि अमल जानदार भी बने अमल अच्छा भी बने और अमल अल्लाह के खजाने से लेने वाला बने क्या अमल जानदार भी बने कि पूरा पूरा अमल क्या अमल जानदार भी बने उसमें हकीकत पैदा करना एक मेहनत है अब आप देखें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने के अंदर कि सहाबा रिजवान के अंदर पूरा दिन था सौ फीसद इबादत थी कि नमाज जमात के साथ में थी सौ फीसद नमाजें थी कि कोई बेनमाजी नहीं था कोई भी बेनमाजी मदीना में कोई भी बेनमाजी नहीं था बल्कि मुनाफिक जिसके दिल में खोट है वो भी जमात से नमाज पढ़ता था जमात की नमाज नहीं छोड़ता था ऐसा माहौल बनाया था सही बात है सौ फीसद बल्कि और आगे फराइज तो फराइज कि सुन्नतें कि जितनी सुन्नतें वो पूरी पूरी थी जो सुनत है नबी अलैहि की सुनत है नमाज में ईशा की कितनी है सत्रह है एहतमाम था सत्रह रकात पूरी पढ़ने का फिर जो सुन्नत मौकत है वो भी सुनत गैर मक्कत है वो भी फिर नवाफिल है जितनी तैयतुल वजू तैयतुल मस्जिद आप देखो कि जो भी मस्जिद में दाखिल होता पहले दो रकात नमाज पढ़ता वजू करता पहले दो रकात नमाज पढ़ता और फिर जिसके फजाइल है जो नमाज के उसका एहतमाम इशरा चाश अबाबीन और तहजुद सुबह में जल्दी उठने का माहौल तो इबादतें सौ फीसद थी नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो इबादत सौ फीसद थी कि फिर उसके बाद माशरत सौ फीसद थी सौ फीसद शरीफ पर्दा था कि घरों में सौ फीसद दीन था कि घरों में शादियां मौत मैया सौ फीसद दीन के ताबे थे सौ फीसद माशरत सौ फीसद मामला मामला सौ फीसद थे कि हुकूक का मामला ऐसा था कि हर एक माफ कर देता था कि भाई माफ माफ नहीं लेना मुझे एक माहौल बनाया था हमको कहता है कि ये कोई अपने जिम्मे के माफ हाँ और और कोई आता पूरा पूरा देते थे क्या हुकूक नहीं बल्कि इशार और हमदर्दी और इशार और हमदर्दी थी खैर खाई थी और ऐसा कि माल की मोहब्बत ही नहीं थी वाकियात आप सुनो कैसे कैसे वाकियात है कि बिल्कुल माल की मोहब्बत नहीं है ऐसे वाकियात ऐसी चीजें कि माल की बिल्कुल बिल्कुल मोहब्बत ही नहीं है माल की कैसे हाँ। मामला की सफाई थी बिल्कुल कांच जैसे कि कपड़ा सफेद के बिल्कुल उसमें धब्बा नहीं था ऐसे मामला थे और फिर ऐसे अखलाफ थे इनका का नाडा फुल्लुबिल अजीम नबी अलैहिस्सलाम का नमूना था ऐसा साहबा रिजवान तजमाइन कि कोई आकर जो वो दबोच रहा है कि नहीं जबान तो कुछ नहीं कह रहे कोई अनाब शनाब कह रहा है कह रहे उसके बदले में उसको जवाब नहीं दे रहे कोई जुल्म कर रहा है उसको माफ कर रहे कोई काट रहा है उसको जोड़ रहे हैं कोई खिलाता नहीं है उसको पहले खिलाते हैं कोई गिनता नहीं है उसकी गिनती पहले होती है कैसे अखलाक बने हुए हैं तो ये चीजें कि कैसे ये पैदा हुई अब आप चले पीछे नबी अलीसलाम के आने से पहले कि अल्लाह के नबी अलीसलाम जब दुनिया में तशीफ लाए आपके तशीफ लाने से पहले बिगाड़ जबरदस्त था ईसा और नबी अलीसलाम के दरमियान में मेहनत का जो वक्फा था नदियों का कि उसमें बड़ा अरसा गुजर गया पांच सौ साढ़े पांच सौ साल गुजर गए और इंसान हैवान बन चुका था बुलाई का नाम ही बरू मजल क्या हैवान से भी आगे बढ़ गया था कि दरिंदगी इसमें पैदा हो गई थी हाँ जुल्म आम था कत्ल गारत आम थी हकूक पामाल थे बस उन्वानिया थी हाँ आप इसे अंदाजा लगाओ ये बच्ची को जिंदा दफनाया जाता था ये माहौल था कुरान कह रहा है वैदा बुशर अहमद बिल उनका वजू वजहू मुस्बतम हुवा कदीम यतवारा मिन अल कौम मिन सुई मा बुशर बि अयमसकु अला हुनिन अम यदसु फी तुराब घर में बच्ची पैदा होती तो वो जल्दी से दफना देते जल्दी से आज भी वो जगह मौजूद है कि गवारा नहीं करते कि मेरे घर में बच्ची पैदा हो मेरा कोई दामाद बने ऐसा जहालत का माहौल जाहिलियत जमाने जाहिलियत की या बच्ची को जिंदा दफना देना हाँ और औरत उसका शोहर मर जाता तो वो बिचारी को महले में रहने का हक नहीं अच्छा और आगे तो उसको कपड़े बदलने का हक नहीं उसको गांव के किनारे कर देते और बकद्र रमत के साथ बाकी रहे इतना खाना उसको देते वो कहने न कपड़े बदलने की वजह से गुसल न करने की वजह से उसके जिसम पे जहर फैलता उसमें अगर कीड़ा मकोड़े चलते तो मर जाते कि फिर भी अगर वो जिंदा रहती तो उसकी इज्जत कैसे पूरी होती तो उसके बालों को कटाते गधे पर बिठाते और शहर में फिराते ऐसी चाहिए कि जिहालत ऐसी टॉप लेवल पर पहुंची गई कि इबादतें बिगड़ी हुई है माशरत बिगड़ी हुई है इबादतें बिगड़ी हुई है कि इबादत के बैतुल्ला का तवाफ नंगे कर रहे हैं ऐसा बिगड़ ऐसा बिगाड़ अब आप अंदाजा लगाओ कि ऐसा बिगाड़ इनमें था और आकाई नामदार दाते न मदीना फकर तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि तशरीफ लाए और आपने एक मेहनत की आपने मेहनत की कि जिस मेहनत के नतीजे में जो बिगाड़ था वो बिगाड़ खत्म हो गया कि जो जान लेने वाले थे जान देने वाले बन गए कि इशारों हमदर्दी और खिदमत पैदा हो गई हाँ क्या मामला के मामला में हक माफ करने वाले बन गए क्या अखलाक कैसे बने क्या अखलाक ऐसे बन गए कि नबी का नमूना बन गए इबादतें टॉप लेवल पर पहुंच गई कि माशरा बेहतर से बेहतर बन गया हाँ कि हमदर्दी पैदा हो गई कि जान लेने वाले जान जान देने वाले बन गए और भूखे रहकर मेहमान को खिलाने वाले बन गए कि जो लूट रहे थे हक के लिए लड़ते थे और पूरा पूरा खानदान खत्म हो जाता था वसीयत करता था एक मेहनत हुई एक मेहनत थी जिस मेहनत के नतीजे में अल्लाह के नबी सलाम ने एक मरतबा मस्जिद नबी में ऐलान किया आमतौर पर फाका चलता था घरों में खाने की चीज नहीं थी मेहमान आए नबी सलाम के पास में कोई ऐसी होती मेहमान को खिलाते थे मेहमान आए आपके पास कोई खाने की चीज नहीं थी आपने जो है वो साहबा से कहा कि कोई है मेहमान को ले जाए खाना खिलाए और सबके घरों में यह माहौल बना हुआ था कि खाने की कोई चीज नहीं थी हाँ ऐसा माहौल एक साहबी रजी अल्लाह तला उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह इनको मैं अपने घर ले जाता हूँ मैं अपने घर इनको जो है खिलाऊंगा वो साहब रजी अल्लाह तमलू घर पहुंचे और घर जाके कैसी मेहनत थी कि हमें ऐसी मेहनत करनी है तो ये मेहनत का मुतालबा है कि कौन सी मेहनत थी तो वो ईमानी मेहनत थी ये कौन सी मेहनत थी वो ईमानी मेहनत थी इसलिए मान अली फरमाते थे कि मैं इसका नाम रखता तो तहरीक ईमान रखता जैसा मैं नाम रखता तो क्या नाम रखता के ईमान कि तो वो कैसी मेहनत की कि कैसे कैसे बन गए कि वो तो बने घराना बन गया कि तो वो घर पर पहुंचे और घर पे जाके बीवी से कहा कि मस्जिद नबी से नबी अलीसलम के मेहमान को लेकर आया हूं हाँ मेहमान को खाना खिलाना है अब बच्चे अब बीवी क्या कह रही है कि बच्चे हैं और बच्चे भूखे हैं और चंद टुकड़े पड़े हुए हैं बीबी कहती है देखो मियाँ जी आपको तो भूखा रहना है मुझे भी भूखा रहना है और ये चंद टुकड़े जो है वो किसके लिए बच्चों के लिए है हाँ और माँ माँ अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है लेकिन बच्चों के लिए ये बच्चों के लिए सारा लगा देती है लेकिन बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाती लेकिन अल्लाह पर वो मेहनत ऐसी थी उस मेहनत के जरिए ऐसा माहौल घर के अंदर बना था कि घर के अंदर के बच्चों को उन्होंने फुसलाया कि बीवी क्या कह रही है कि कोई बात नहीं दस्तरखान बिछा लेना कितना खाना है कि मेहमान अकेले खा लेंगे कि आपको तो भूखा रहना है आपको तो भूखा रहना है लेकिन साथ में मेहमान के साथ दस्तरखान पे बैठना है और चिराग बुझा दूंगी या बुझा देना और इधर बच्चे बिल बिला रहे हैं अंदर औरत बिल बिला रही है भूख ऐसी है तो शिद्दत की भूख है पत्थर बांधे जाते थे ऐसी शिद्दत की भूख है कि भूख बर्दाश्त हो ऐसा नहीं है कि जैसे अभी गर्मी बर्दाश्त की हो रही है ऐसे भूख लेकिन एक तकाजा एक माहौल एक मेहनत एक मेहनत हुई है जिस मेहनत के नतीजे में आदमी बना हुआ है और ऐसा बना हुआ है कि इखलास इसके अंदर इस घुट्टी के अंदर है कि मेहमान खाने के लिए बैठ रहे हैं और मेहमान को पता नहीं है इस घर के अंदर बच्चे बच्चे भूख की वजह से बिलबिला रहे हैं और औरत अंदर बिलबिला रही है और ये तो मेरे सामने बैठा हुआ है ये भी भूखा हुआ है और ये भी खाना नहीं खा रहा है ये जो खाना है ये मुझे खिला रहा है कि दस्तर खान पर बैठकर वो बैठे हुए और मेहमान ने पेट भर लिया मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हैं मेरा कहना है आपको सुनना है लेकिन उस घर में वो वाक्य पेश आ रहा है क्या अच्छा होगा आप अंदर को तो सोचो लेकिन वो एक मेहनत की एक मेहनत कि जिस मेहनत के नतीजे में अंदर ये बात उतर गई थी इतना हमदर्दी कि खुद भूखा रहना है मेहमान को खिलाना है एक तकाजा आया है इस तकाजे को पूरा करना है मस्जिद नबी से एक तकाजा आया है अंदर एक एक जज्बा है हाँ, और ऐसा ही हुआ ऐसा ही हुआ तो मेहमान ने खाना खा लिया बच्चे अंदर भूखे रहे बीबी भी भूखी रही और मैं जो है वो मेजमान कि वो साहब रजी अल्लाह तला के दस्तर खान पे बैठे कि वो भी इन्होंने कुछ नहीं खाया और मेहमान ने खा लिया वो तो जब सुबह पहुंचे तो फिर पता चला कि रात में ये वाक्य पेश आया है कि किसके घर पेश आया है वो साहब भी बता नहीं रहे थे अल्लाह के तो फिर पूछा फिर पूछा कहने लगे क्या रसोल्ला मेरे घर ये वाक्य पेश आया है कि रात में ये मेहमान तो हम ले गए कि बच्चे भी भूखे रहे और बीवी भी भूखी रही और या रसोल्ला मैं भी दस्तरखान पे भूखा रहा और मेहमान ने खा लिया हाँ अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी शान में ये कुरान की आयत उतरी है हाँ ये जब भी वो आयत पढ़ेंगे तो सहाबी का जिक्र होगा कि कैसे कैसे बन गए कौन सी मेहनत थी ईमानी मेहनत थी कौन सी मेहनत थी ईमानी मेहनत अल्लाह के नबी वसल्लम ने ये मेहनत को किया कि मेहनत जो हमें अपनी जात के अंदर पूरा दिन लाने के लिए कि कैसे पूरा दिन अपने अंदर आएगा कि सहाबा में जैसा आया इबादत माशरत मामला अखलाक किताब हमदर्दी ये ईमान की मेहनत से आया ये पूरा दिन ये पूरे दिन का मुतालबा है कि ईमान की मेहनत से दो बातें पैदा होगी जब ईमान की मेहनत हर बंदा जब शुरू करेगा तो पूरा दिन भी आएगा और दिन के अंदर हकीकत पैदा होगी ईमान अंदर हकीकत पैदा करता है ईमान अमल के अंदर जान पैदा कर देता है हाँ तो इसलिए हर एक से मुतालबा है ईमान की मेहनत का <clears throat> अल्लाह के इसलिए साहबा कहते हैं तालम नल ईमान तो हमने पहले ईमान को सीखा तालम दल कुरान फिर कुरान को सीखा तुम तालम नल कुरान कि पहले क्या सीखा कि पता चला कि ईमान सीखने की चीज है इसलिए अल्लाह का कहते हैं अल्लाह ईमान जो है वो सीखने की चीज है ईमान को सीखो कि सबसे पहले क्या सीखो ईमान को सीखो हम सबसे मुतालबा है हम सबसे मुताल है कि पूरे दिन का और पूरे दिन लाने के लिए ईमान अब ईमान बहुत आसान है ईमान बनाना बहुत आसान है ईमान की जगह क्या है कि ईमान की जगह दिल है कि ईमान के बोल क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह ये ईमान के बोल है ये ईमान की जगह दिल है ये ईमान के बोल है अब ये बोल को दिल में उतारना है कि दिल में जाने के रास्ते कौन है कि चार रास्ते हैं दिल में जाने के कि आग जबान कान दिमाग ये रास्ते चार रास्ते ये चार रास्ते से जो चीजें अंदर जाएगी क्या अभी क्या अंदर गई है कि गैर गया है अंदर क्या गया है हाँ गैर इला इलाहा इलाह कोई इला नहीं जितनी सब चीजें सब मखलूक है इला कोई नहीं है सब मखलूक है सब मुर्दा है किसी से नहीं होता ये पूरी कायनात में दो चीजें एक एक एक अल्लाह है और दूसरे अल्लाह का गैर है अल्लाह एक ही है और सारा कौन है कि अल्लाह का गैर है एक अल्लाह है एक इलाह मिला अहद एक है एक ये बाकी जो भी है ये वो गैर है कि अल्लाह का गैर अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकता अल्लाह का गैर अल्लाह के बगैर कुछ नहीं सब मखलूक है कुछ नहीं कर सकती चाहे सुप्रीम पावर हो चाहे बड़ी से बड़ी ताकत हो हाँ चाहे बड़ी से बड़ी मखलूक हो लेकिन मखलूक है और मखलूक के माने मुर्दा के क्या है मखलूक के माने मुर्दा के और अल्लाह के माने खालिक है ये वही करता है कि इनसे किसी से कुछ नहीं होगा अल्लाह का गैर अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकता अल्लाह अपने गैर के बगैर सब कर सकता है हाँ किसी शक्ल का पाबंद नहीं तो उसका कोई वजीर नहीं उसका कोई मुशीर नहीं उसका कोई मशवरा देने वाला नहीं उसकी कोई औलाद नहीं वो किसी की औलाद नहीं तने तना अकेला है पहले से और आखिर तक है वल अव्वल वल आखिर वही पहला है वही आखिर है और वही बाकी रहने वाला है कुल्लू मनाली या पान ये सब फना हो जाएगा वही एक बाकी रहेगा कि वही है वही पावरफुल है और वो अल्लाह है वो क्या है अल्लाह है वही खालिक है वही मालिक है वही रजाक है वही काम बनाने वाला है उसी के हाथ में सब कुछ है कि किसी के हाथ में नहीं है हाँ कि किसी के हाथ में कुछ नहीं है उसी के हाथ में है कि वो अल्लाह है कि अब दिल में गैर है <clears throat> कि उस अल्लाह को लाना है दिल में कि जो सब कुछ कर रहा है कि सब कुछ उसके हाथ में है सब उसके मोहताज है सारे क्या है उसके मोहताज है और वो किसी का मोहताज नहीं है वो शक्ल का भी मोहताज नहीं है हाँ वो पानी बरसाने में आसमान का मोहताज नहीं है वो गल्ला उगाने में जमीन का मोहताज नहीं है वो पेट भरने में खाने का मोहताज नहीं है वो प्यास बुझाने में पानी का मोहताज नहीं है वो चाहे तो तन्नूर में से पानी निकाले कुरान में बात करते वफार तन्नूर ये तन्नूर में से पानी निकला वो चाहे तो बिगैर मौसम के फल दे वो पाबंद नहीं है कि मौसम मौसम से जो फल मिलेंगे नहीं बगैर मौसम के फल दे हजरत मरियम फल खा रही है अन्ना लगी हादा कहाँ से आए जकरिया ने सवाल किया कि कहाँ से आए न मार्केट में है न इसका कोई मौसम है कहाँ से आए तो फौरन जवाब दिया आलत हुआ बिन दिल्ला ये किसने दिए अरे किसने दिए हाँ उसने उसने दिए और वो देता है वो किसी शक्ल का मोहताज नहीं है वो पाबंद नहीं है कि जब बंदा उससे अपना रबता मजबूत कर लेता है उससे अपना ताल्लुक मजबूत कर लेता है अपनी पहचान उससे कर लेता है और उसके हुक्मों वाली जिंदगी बना लेता है तो फिर वो पूरी कायनात उसके ताबे कर देता है वो चाहता है फिर अल्लाह कर देता है हाँ इसलिए कि वो करता है करता कौन है अल्लाह करता है कि वो फल देने में मौसम का पाबंद है वो बेटा देने में हाँ किसी किसी का पाबंद नहीं है मिसाल है कि बाप का भी पाबंद नहीं है हाजिर मुतलक है बाप का पाबंद है बाप का पाबंद है हजरत सलाम को गिरती पैदे की बगैर माँ बाप के पैदा की हजरत आदम इस्लाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया कि वो पाबंद नहीं है वो उसकी सुन्नत है लेकिन वो किसी शक्ल का पाबंद नहीं है ये है वो अल्लाह हाँ हाँ तो वो वो करता है उसी के हाथ में सारी चीजें है सब कुछ उसी के हाथ में वही करता है कि कौन पालता है फिर जब सब कुछ वो करता है तो पालता कौन है हाँ आदमी बोलता तो है कि सब कुछ वो करता है लेकिन दुकान में चलाता हूँ तो पैसे मैं कमाता हूँ हाँ, अरे भाई दुकान भी वही चलाता है कि दुकान भी वही चलाता है और पैसे जो तेरे अपने पास में आते हैं ना वो वही देता है एक ही दुकान एक ही आइटम समझ में बाजू में भी वही है एक को नफा होता है एक को नुकसान होता है ये कौन ये नहीं कोई है कोई कौन है वो अल्लाह है ये दुकान चलाने वाला अल्लाह है रोजी देने वाला अल्लाह है हाँ ये जितनी चीजें दिख रही है ना ये सब ये कीड़ी ने कड़ ने हाथी ने मण ये सबको वही देता है ओमा बिंदा बतिन पिल अर्दी ये सबको वही देता है बड़ी बड़ी मछलियां ये सबको वो देता है जितने जानवर है सबको वो देता है कोई जानवर की दुकान कि भाई दुकान से पलता हो है जानवर है कि कोई दुकान या कभी जानवरों की रैली निकली है कि भाई आज हड़ताल आज खाना नहीं मिला ये चलो भाई आज हड़ताल है ये खाना नहीं मिला हाँ ये नहीं भाई ये जाहिरी इसबाब है ये करने वाले अल्लाह है काम बनाने वाले अल्लाह यह एक बात समझने की है कि ईमान बनाने के माने <coughs> ये है कि इसबाब का इनकार नहीं है इसबाब को छोड़ना नहीं समझना हाँ इसबाब तो है लेकिन करने वाला कौन है अल्लाह है अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर हमें समझाया मूसा सलाम के जरिए बाकिया बयान करके कि मूसा सलातम जा रहे थे हाथ में लाठी थी लकड़ी थी तो अल्लाह पाक ने पूछा तो मामा दिल का भी हमें नहीं कहा मूसा तो मूसा आपके हाथ में क्या है तो अल्लाह को पता नहीं था अल्लाह को अल्लाह जानते थे लेकिन अल्लाह ने तो मूसा सलाम ने जवाब दिया अला ही आशा है अल्लाह ये तो मेरी लाठी है हाँ क्या मतलब भाई मेरी दुकान है ये आज हाँ, देखो भाई मार्केट में दुकान है होलसेल की दुकान है और भाई समझते हो दो बच्चे अमेरिका है एक बच्चा कैनेडा है और एक की फुला है दुकान है मेरी वमा तिलका काला या साय अतवक्कु अलैहा व बिहार बिहा ला बोले या फिहा मारी बुफरा ये भाई मैं तो जो हम कहने लगे कि पत्ते जाड़ता हूँ टेक लगाता हूँ और बहुत सारे काम है तो इससे मेरे काम भाई बात समझ में आ रही है तो अल्लाह पर ने क्या फरमाया अल्लाह पाक ने कहा अच्छा पिया या मूसा मूसा जरा डालो तो सही जिससे काम बनते हैं पत्ते जाता हूँ टेक लगाता हूँ बहुत सारे काम है जैसे इसको डालो तो सही देखे तो सही हम तो ये तुम्हारा ये लकड़ी तुम्हारा क्या काम बनाती है लाठी तुम्हारा क्या बनाती है हाँ फलकिया मूसा तो मूसा सामने डाला जब जैसे डालता तो फल कहा फैदा ये हैया तुम तो वो तो क्या बन गया साफ बन गया अंधा बन गया हाँ तो क्या हुआ तो काम बनते थे अच्छा भाई क्या हुआ लॉकडाउन आ गया क्या भाई दुकान से बोलते थे क्या हुआ के <laughs> पैसे से काम बनते थे नोटबंदी आ गई क्या हुआ भाई पैसे से काम बनते थे हाँ के नहीं भाई देखो नोटबंदी है पैसे से काम नहीं बनते और जब चलते थे तब भी नहीं बनते कि बनने बनाने वाले हम है हाँ लॉकडाउन में दुकान आपकी बंद रही कि किसने खिलाया कि अल्लाह ने खिलाया कि मजदूर की मजदूरी बंद हो गई कि मजदूर भी नहीं गया रोज के सौ दो सौ रूपये खाता था जिंदगी में बिचारे कभी सर के अलावा कोई चावल नहीं खाए लेकिन अल्लाह ने उसको बासमती खिलाए डेढ़ सौ रूपये किलो वाले दो सौ रूपये किलो वाले चावल उसको खिलाए किसने खिलाए कि अल्लाह ने खिलाए हाँ, हाँ। तो अल्लाह मूसा सलाम एकदम फिर अल्लाह को क्या कि क्या है मूसा कि ये क्या है हाँ, हाँ। अल्लाह पकड़ेगा खुजा वाला तहफ सनाई ये बात समझाई कि भाई देखो दुकान पे जाओ मेहनत करो जाना है दुकान में कारोबार में जाना है धंधा करना है छोड़ नहीं देना मलंग नहीं बनना है कि कारोबार में जाएंगे लेकिन कारोबार के नहीं रहेंगे किसके किसके हाँ ये अंदर नहीं लाएंगे कि दुकान से मैं बलता हूँ पैसे से मेरे काम बनते हैं और मैं चलाता हूँ कि घर में कौन चलावे थे कि हूँ चलाऊ छू कि हूँ छू तो घर छे हाँ बेटे क्या कह रहे हैं कि अब्बा है तो सब है हाँ हाँ और अब्बा क्या कह रहे हैं दुकान है तो सब है कि नहीं भाई सब मखलूक है हाँ कि सब है ये नक्शा है ये नक्शा करने वाले कौन है अल्लाह है ये करने वाले अल्लाह ये बात दिल में मेहनत से उतारना है आंखों के जरिए कि कैसे ये बात दिल के अंदर उतरेगी कि आंखों के जरिए जो अल्लाह से होता है उसको देखना है हाँ और जो गैर है गैर से होता है उसका इनकार करना है कि उसका कि दिल की तरफ रुझू कर दो कि दिल का ढक्कन खोल दो हाँ और मर्जा ये बना लो कि किसकी तरफ निस्बत है कि अल्लाह की तरफ कि जितनी लोग एक मखलूक इनसे नहीं होता है कि जितना हो रहा है उन सब का इनकार करो और अपना भी इनकार करो कि मेरे से भी नहीं होता मैं दुकान को नहीं चलाता मैं बीवी को नहीं पालता मैं बच्चों को नहीं पालता मैं घर को नहीं चलाता ताकि आदमी ना कहे मैंने किया मैंने किया मैंने किया हाँ मैं गया तो ऐसा हो गया मैं गया तो ऐसा हो गया अरे क्या हुआ अभी मैं के माने क्या होती है बकरी होती है समझ में आया हाँ इसको मैं को निकालना कि नहीं अल्लाह ने किया ये मेहनत है एक मेहनत के जरिए ये जितना हो रहा है अब उसमें आदमी अल्लाह की पहचान के लिए आदमी अल्लाह की बड़ाई के बोल तकल्लुक बोले इससे अंदर ईमान उतरेगा जबान के जरिए आदमी बोल बोले अल्लाह करते कौन करता है हाँ ये बात बोलनी है अल्लाह करते हैं अल्लाह खिलाते हैं अल्लाह पिलाते हैं आसमान किसने बनाए अल्लाह ने बनाए जमीन किसने बनाई अल्लाह ने बनाई ये बातें बोलनी आदमी बोलता रहे और बोलने के लिए कि मैदान है पूरा कि हमारी मेहनत घर घर जावे दर दर जावे हर फर्ज फर्ज के पास में जावे और फर्ज क्योंकि अल्लाह से होता है और उसे अल्लाह की पहचान करवाए कि भाई कौन ये सब करते अल्लाह करते उस अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है वक्ती है उस अल्लाह ने आखिरत बनाई है हाँ और उस आखिरत में जाना है कि अच्छा भाई दुनिया में मैंने तो जिंदगी जाय कर दी उसको समझाने नहीं भाई अल्लाह करीम है तोबा कर ले क्या कर ले भाई अल्लाह की पहचान है अल्लाह की पहचान से कराओ कि वो करीम है वो रहीम है वो कपूर है वो वो ऐलान कर रहा है कि नबी जी कहो पुलिया इबादी नबी जी मेरे बंदे से कहो कि दुनिया में गफलत के साथ जिंदगी गुजार रहे मुझे नहीं जानते मुझे नहीं पहचानते इन्हें कहो इन्हें समझाओ हाँ कि अगर ये मुझसे आके माफी मांगे ला तकना मेरी मेरी रहमत बसी है हाँ कि चाहे पूरी जिंदगी गुनाह में गुजरी है चाहे पूरी जिंदगी गलत काम में गुजरी है और दुनिया ऐसे ही जाय करती है कि दुनिया ऐसे ही इन्होंने गुजार दी है और आखिरत का कोई प्रोग्राम नहीं है कभी मुझे याद नहीं किया लेकिन इसे को ला रहमतिल्ला कि अब ये इन्हें समझाओ कि अल्लाह करीब तोबा कर ले भाई एक एक के घर में जाकर बैठकर उसके समझाओ भाई तोबा कर भाई गलत काम छोड़ दे गलत जिंदगी छोड़ दे अल्लाह की नाफरमान वाली जिंदगी छोड़ दे रब करी में आज मौका है आज का आंसू कीमती है आज की तोबा कीमती है अल्लाह कहते मैं सब माफ कर दूंगा हाँ ऐसा रब करीम है कि बनी इसराइल में एक बूढ़ा आदमी बूढ़ा आदमी ये जिंदगी नाफरमानी में गलत कामों में गुजरी और लोग नफरत कर रहे थे जिंदगी ऐसे उसकी गुजर गई कि लोगों ने उसको उठा के बाहर डाल दिया ये आदमी बदबक है ये लोगों ने उसको उठा के बांट दिया वो बूढ़ा आदमी सारे रास्ते कट गए अब वो अल्लाह की तरफ देख रहा है और अल्लाह से बातचीत कर रहा है अल्लाह सब बंद सारे रास्ते बंद हो गए सबने धक्के मार दिए तेरा दर खुला है हाँ ऐसा रब है रब करीम है यहाँ आदमी को नाउमित नहीं होना चाहिए क्या शैतान मायूस करता है नाउमित करता है ये भाई तूने तूने इतने सारे चूहे खाए अब तू हंस को जा रहा है कि नहीं कोई बात नहीं अल्लाह करीम है निन्यानवे का खातिर कि उसके लिए भी रास्ता है हाँ, इसलिए गादी इस वाक अजीब है कि तेरे गुना समंदर के झाग के बराबर तेरे गुना रेतियों के धजे के बराबर और तेरे गुना दरख्तों के पत्तों के बराबर और तेरे गुना रेती के रेती रेती के बराबर फिर तू मुझसे आके माफी मांग अल्लाह पाक कहते मेरी इज्जत की कसम मेरे जलाल की कसम मेरे शादी की कसम मैं तेरे सारे गुना माफ कर दूंगा अल्लाह उबाली मुझे किसी की परवाह नहीं ऐसा करीम रब है अल्लाह जैसे मुझे आपको तोबा करनी चाहिए और एक एक को इसकी अल्लाह की पहचान करनी चाहिए अल्लाह को हम पहचान है आज आदमी कौन से किसको बोलता है गैर को बोलता है किसको बोलता है हाँ पैसा पैसा दुकान चीजें शक्लें किसी को बोल बोल करता है बोल बोल करता है तो क्या होता है कि जिसको बोलता है वो अंदर उतरती है हाँ मसला टेढ़ा है बहुत मसला टेढ़ा है मौत हम सब हम सबके ऊपर लगी हुई है सर पे मंडरा रही मौत हाँ जैसी जिंदगी गुजारोगे ऐसी मौत आएगी कि जैसी जिंदगी गुजारोगे कि अभी चीजों को दिल में लिया है हमने और चीजों को बोल हमारे आप देखो एक आदमी कपड़ा बेचता है ना एक आदमी कपड़ा बेचता है उसकी आवाज होती है सौ रुपया सौ रुपया सौ रुपया आवाज लगाता है आवाज लगाता है सौ सौ रुपया तो वो बोलता रहता है बोलता रहता है आप देखो बोलता ही रहता है सौ रुपया सौ रुपया तो रात को जब सोता है ना तो नींद में भी बड़बड़ाता है सौ रुपया सौ रुपया सौ रुपया कि दिन भर मेहनत हुई रात में हकीकत हकीकत जाहिर हो गई हाँ अल्लाह वाली बात फरमा ये सारा गैर है कि ये गैर में कि अल्लाह से होने को बोलना है कि ये गैर में जाकर अल्लाह से होने को बोलना है अल्लाह करते हैं अल्लाह की पहचान होने को करवाना है कि ताकि हम अल्लाह की पहचान करवाए ताकि हमारे दिल में अल्लाह आए एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब हजार मरतबा तुम कहो कि अल्लाह से होता है तो दिल एक बार कहेगा अल्लाह से होता है कभी दिल के अंदर नहीं है हाँ इसलिए दौड़ते हैं चीजों की तरफ शक्लों की तरफ आदमी भागता है और एकदम एकदम टेंशन में आ जाता है हालात आते हैं तो परेशान हो जाता है अल्लाह की तरफ नहीं रुचता कि भाई ये सब हालात भी मखलूक है हाँ ये सीजन भी मखलूक है सब मखलूक है कि कोई बात नहीं बारिश हो गई कि मखलूक है सब अल्लाह के हाथ में है नफा असल अल्लाह के हाथ में वो देने वाला है कि बारिश के होने से हमारे काम नहीं बिगड़ते हाँ कि बनने बनाने वाला अल्लाह है ये बात हकीकत है कि अल्लाह की बड़ाई के बोल ताकि गैर दिलों के अंदर से निकले नबी सलाम के जमाने में कि हर एक के, एक माहौल ईमान का बनाया हुआ था हर एक जबान पर अल्लाह था तो जब मिलते थे ना तो क्या था कि मिलते वक्त भी क्या तस्वुर था कि कैसे हो यानी क्या तस्वुर था कि आखिरत कैसी है हाँ तो उस रब से मिलना है आखिरत में तो मिलने की तैयारी की है कि नहीं हाँ कि कबर में जाना है कबर में सवाल होगा मन रब का कि तुम्हारा रब कौन है तो उसकी तैयारी कहने कि भाई कैसे हो तो तैयारी में होते कहते अल्हम्दुलिल्लाह दिन भी अच्छा है रात भी अच्छी है हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रात अच्छी गई हाँ दुनिया के माहौल में होते ईमान का माहौल होता अल्लाह की पहचान का अल्लाह की बड़ाई का आखिरत के तस्करे का अब हसन नसर कुरसिरत के तस्करे का तो फिर वो कोई हमला होता ना तो मुतासर नहीं होते हजरत हुजफा रजी अल्लाह के जो बादशाह के पास में पहुंचे नसरानी बादशाह था तो उसने बादशाह जो उसने पेश कर दी कि भाई नसरानी इख्तियार कर लो बादशाह तुम्हें मिल जाएगी और ये जितने खजाने हैं ना वो सारे खजानों में आधा आधा तुम्हें मिल जाएगा चौंक गए फौरन हाँ फौरन चौंक गए कि हाँ ये ईमान की मेहनत थी कि फौरन कि मेरे ईमान पे हमला हो रहा है इस पे हो रहा है ईमान पर ऐसी मेहनत हो कि आदमी चौकन ना हो जावे और अमल करने में कि मसरूम चीजें भी ना छोड़े ईमान ईमान जब बढ़ेगा ना तो ईमान जो इबादतों पे डालेगा कि मसरूम चीजें भी नहीं छूटेगी और ईमान बढ़ेगा तो फिर गुना तो बहुत दूर की बात मकरू चीजों से भी आदमी बचेगा मकरू चीजों से भी आदमी बचेगा मकरूहत शरिया हाथ तबिया बन जाएगी जब ईमान बढ़ेगा तबीयत आदमी की गुना के गुना करने का जी नहीं चाहेगा ये अंदर से एक तबीयत बनेगी तो ये तबियत पैदा हो एक मेहनत है तो ईमान बनाने की एक मेहनत है कि ईमान के बोल को बोलना अल्लाह से होता है अल्लाह करते हैं कि आदमी इसको बोले तो जब आदमी बोलना शुरू करेगा ना बोलता रहेगा बोलता रहेगा और अल्लाह की पहचान हम कराते रहेंगे अल्लाह की सिफा जितनी इसको बोले कबर हसन नसर को पुलसिराज निजार इसको बोले कबर के आपस में तस्करे करे बैठ कर जैसे अभी यहाँ पर आए ना फारिक वक्त में आपस में दूसरों से मुलाक बैठ कर करे भाई कबर में सूते से आपड़ू कि अंधेरा लाइट जाती है अंधेरे में नहीं रहते कबर में कैसे रहेंगे हशर में क्या बात बनेगी उस सिराक में कैसे गुजरेंगे अरे नामे अमाल नामे अगर अगर उल्टे हाथ में मिल गया तो क्या होगा कफामा मन तो बुद्धि किताबिया इन्नी जनंतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया वो दिया कैसा कैसा होगा तो जिसको जिसको नाम अमल सीधे हाथ में मिलेगा उसके इसकी तो यह हालत होगी और जिसको तो बिशमाली पूर्व या लेता नहीं लम होता कितना दिया वलमदरी माँ दिया या लेता कानत दिया माँ अगना ने माँ लिया माँ अगना अब उस वक्त वो अफसोस करेगा आदमी इसके तस्करा करे ये चीजें किसी हकीकत है इसको बोलना अल्लाह के वादों को बोलना ये भाई जो वादे अल्लाह के उसको हमें पूरा करना है ये भाई अल्लाह कर रहे हैं और अल्लाह के हुक्म के अंदर अल्लाह के वादे नमाज पढ़ोगे तो भाई रोजी में बरकत होगी हाँ इसलिए अल्लाह पाक ने मुसा इस्लाम से कहा कि मुसा इस्लाम लकड़ी को उठाओ खाना खुदा और डरो मत कि भाई ये शक्लें आप करते तो फिर ये शक्लें कि नहीं ये शक्लों में जाना है दुकान पे जाना है पाबंदी करनी है कमाना है आवारागर्दी नहीं करनी मेहनत करनी है कि आदमी मेहनत करे आदमी कमाए लेकिन दुकान का ना हो तो ये बात समझानी है कि फिर कौन देगा कि रोजी के नमाज के एहतमाम पे हयाल सलाह हयाल फलाह कि कामयाबी नमाज में है कि आदमी दुकान का नहीं रहेगा नमाज का रहेगा दुकान आसान हो गई तो फिर चेहरा बदल जाएगा तो आप वो समझेगा ग्राहक भेजने वाला अल्लाह है दुकान चलाने वाला अल्लाह है काम बनाने वाला अल्लाह है मुझे दुकान को छोड़नी नहीं लेकिन मुझे दुकान का होना नहीं है कि मेरे काम तो मेरे अल्लाह के हुक्म को पूरा करने से बनेंगे तो ये बात दिल की गहराइयों में ये ईमानी बोल है बेईमानी ईमानी बोल को बोलना आपस में घरों के अंदर बोलना घर के अंदर बैठे घर का माहौल बनाकर घर के अंदर बोलना ईमानी माहौल बने कि सहाबियाते सहाबा ने के जब बच्चों थे के बच्चों के अंदर भी ईमानी माहौल था बनाया हुआ था हाँ हमारे बुजुर्ग रहे थी घरों के अंदर ही बीमार तो मशक मश्क करवाते माए मश्क करवाती थी बख्तियार काकी रहमतुल्ला के उनकी माँ बचपन से उनको ईमान सिखाती घर का माहौल बना हुआ था घर के अंदर ईमान की बेटा कौन खिलाता है बेटा कौन पिलाता है कौन काम बनाता है तो बेटा कहता अल्लाह और माँ चुपचाप रख देती बेटा तुम्हें भूख लगी है भूख लगी है खाना खाना है चलो बेटा जल्दी वजू करो अल्लाह खुलाता कौन है कि अल्लाह कि अल्लाह अल्लाह अल्लाह के से लेने का तरीका क्या है बेटा नमाज पढ़नी है वजू करो बेटा और वजू करके नमाज पढ़ो वो छोटा बच्चा है मासूम बच्चा है ईमान का माहौल बनाया जा रहा है घरों में कि अपने घरों में ईमान का माहौल बनाना ताकि हमारी जवान बच्चियां हमारे जवान बेटे कि हमारा मोहल्ला महफूज हो जाए गलत चीजों से ये करने वाले अल्लाह है एक जवान के दिन दिल के अंदर एक डर आए हजरत तुम्हारे रजी के जमाने में माहौल बना हुआ है हजरत तुम्हारे गली के अंदर हजरत तुम्हारे उस घर के अंदर से गुजर रहे उस घर में से आवाज आ रही है कि माँ बेटी बतौर इम्तिहान माँ बेटी को कह रही है बेटी पानी डाल दूध लेने वाले आ जाएंगे दूध कम निकला है बेटी पानी डाल दे लेकिन अंदर किसका डर है अरे किसका डर है हाँ जवान बेटी के अंदर एक ईमानी माहौल बनाया गया है बेईमानी माहौल बनने की वजह से वो बेटी माँ को कह रही है माँ कह रही है कि घबराती है बेटी उम्र नहीं है पानी डाल दे माँ कहती है अम्मी उम्र नहीं है लेकिन उम्र के अल्लाह कहाँ चले गए अल्लाह तो देख रहे हैं एक चरवा कह रहा है हाँ अल्लाह देख रहे हैं कि मैं मालिक को तो क्या नहीं अल्लाह देख रहे हैं पहला अल्लाह को क्या जवाब दूंगा एक माहौल बना हुआ है घर का माहौल बख्तियार काकी रहमतुल्ला इनकी माँ ने इनको सिखाया हाँ और क्या करती थी खाना पका के अलमारी में रख देती ये मस्त है ये बेटा कौन खिलाता है अल्लाह कौन खिलाता है अल्लाह अब एक बार दबा देर हो गई देर हो गई माँ जो है वो आते उसके वो फिक्र हुई उसको कि मेरे बच्चे का ईमान बिगड़ेगा आज कि माओ को उनके बच्चों की फिक्र होती है कि मेरे बच्चे का ईमान बिगड़ेगा कि माँ अपने बच्चों को दीनदार बनाती है जब माँ का ईमान बनता है ना ईमान का माहौल घर में बनता है मरद का बनता है औरत का बनता है एक माहौल बनता है मिल्लत अभी को कि घर में एक मिल्लत तैयार होती है कि घर में एक माहौल बनता है कि वो माहौल की बुनियाद पर या फिर क्या होता है कि फिर बच्चे तैयार हो जाते हैं हाँ कि यहाँ माँ माँ को फिक्र हुई कि बच्चे का ईमान बिगड़ेगा अब जो है वो दौड़ती दौड़ती आई और उसने जल्दी से कुंडी खोली क्या देखा बेटा सो रहा है जल्दी किचन में गई जल्दी जल्दी खाना पकाया और खाना पका के अलमारी में रख दिया और फिर दौड़ कर आई और बेटे से कहने लगी अरे बेटा उठो बेटा उठो बेटा उठो जल्दी उठो बेटा वजू करो बहुत भूख लगी होगी बेटा नमाज पढ़ो और जो वो अल्लाह से खाना मांगो हाँ ये मस्त बेटा बैठ गया और बेटा कहने लगा अम्मी मैंने खाना खा लिया अच्छा, मैंने खाना खा लिया वहां गई बेटा खाना खा लिया हाँ अम्मी अब तो बहुत भूख लगी थी जब मैं घर में दाखिल हुआ तो आप नहीं थी लेकिन ये बात पक्की थी कि आप खाना नहीं देती कौन देता है अल्लाह दे वो छोटा बच्चा कह रहा है कि अम्मी आप खाना नहीं देती खाना तो कौन देता है अल्लाह देता है कि अम्मी जान मैंने तो वजू किया दो रकात नमाज पढ़ी और दो रकात नमाज पढ़ने के बाद जब मैंने हाथ उठाए और अल्लाह से कहा कि अल्लाह आप तो बहुत भूख लगी है और माँ नहीं है लेकिन खाना तो आप देते हैं खाना तो आप देते हैं अम्मी जान के जब मैं उठा अलमारी में गया मैंने अलमारी खोली तो अम्मी जान उसमें एक रोटी मिली और अम्मी जान उस रोटी का ऐसा टेस्ट ऐसा मजा इससे पहले ऐसी रोटी पहले मैंने कभी नहीं खाई माँ कहने लगी कि मेरा बेटा माँ ने गले लगा लिया कि मेरा बेटा अल्लाह के खजाने से लेने वाला बन गया तो नाम पड़ गया काकी बख्तियार काका कहते रोटी को काकी एक रोटी वाले बचपन में ईमान का माहौल बनाया था अपने घरों में ईमान का माहौल बनाना आदमी ईमान का माहौल बनाए ये जब ईमानी माहौल बनता है ना तो सबसे पहली चीज तोबा की तोफीक होती है हाँ कि आदमी गुनाहों पे नदामत करता है गंदे काम गलत काम नहीं करता हाँ कारोबार में सूद नहीं लाता हलाल हराम की तमीज पैदा हो जाती है इश्तेदार पैदा हो जाता है हाँ अपने हलाक को सही करने लगता है कि तोबा की तोफीक होती है कि आदमी ईमान इसलिए ईमान की मेहनत बहुत जरूरी है कि अल्लाह के बोल को बोलना ताकि हमारे ईमान में इजाफा हो इसका माहौल हमें बनाना ये पहली बुनियादी चीज है कि दिल के अंदर से गैर निकले और अल्लाह जो होने होना दिल में आए कि बोलना है सुनना है और जो है वो ख्यालों में लाना है उसको कि सोचना है कि करने वाले अल्लाह है काम बनाने वाला अल्लाह है ये नफा ये मेरी मेहनत से नहीं मिला अल्लाह ने मुझे दिया हाँ ये दवा मैं खा रहा हूँ ये दवा से मुझे शिफा नहीं मिलेगी अल्लाह शिफा देंगे हाँ और करते करते करते करते ये बात पहले नंबर पर आ जाए अभी आती है जैसा कहा ना कि जब बोलते हैं ना तो एक हजार मतलब दूसरों ने कहा तुम बोलोगे दिल एक बार कहेगा ये बोलते रहो बोलते रहो जब बोलोगे दस मरतबा तो दिल कहेगा एक बार अल्लाह से होता है क्या फिर बोलते रहोगे फिर बोलते रहोगे तो फिर दिल एक जब जबान एक बार कहेगी अल्लाह से होता है तो दिल भी क्या कहेगा अल्लाह से होता है इन्ना जबान और दिल दोनों बराबर हो जाए अच्छा, यहाँ तक की मेहनत है कि आदमी ऐसी मेहनत करे अपने ईमान में कि फिर आप ईमान को बढ़ता हुआ देखे हुए जब ईमान पर मेहनत होगी ना तो फिर इबादतें अच्छी बनेगी नमाज सौ फीसद जिंदा होगी नमाज अच्छी बनेगी ईमान की मेहनत पे कि नमाज का जाहिर भी बनेगा कि अभी अमल आदत से है माहौल से है जैसे रमजान का महीना माहौल से चल रहे हैं हम लोग या आदत से चल रहे हैं या हालात से चल रहे हैं अभी अमल में हकीकत पैदा नहीं हुई कि ईमान का माहौल बनेगा ईमान की मेहनत शुरू होगी फिर नमाज में हकीकत पैदा होगी नमाज सौ फीसद जिंदा होगी ये सौ फीसद नमाज का माहौल बनेगा कि बच्चा भी जो है वो बूढ़ा भी और औरतें भी घरों के अंदर सौ फीसद नमाजें पढ़ेगी ये नमाज का माहौल बनेगा और फिर फराइज तो फराइज तो अदा करेंगे करेंगे फराइज के साथ साथ में कि नवाफिल का अहतमाम आएगा तहजुद का अहतमाम आएगा अल्लाह के नबी सलाम के जमाने में तहजुद का अहतमाम था कि तहजुद का अहतमाम होता था हाँ कि नवाफिल नहीं छूटते थे नमाज से पहले के फजाइल कि वो फजाइल का ऐसा इस्तेजार था कि फजाइल के इस्तेजार के जरिए नवाफिल भी नहीं छूटते थे कि ईमान की ताकत है कि ईमान की ताकत आदमी को फजाइल पर डालेगी और आदमी फजाइल सुनेगा अंदर एक ताकत बनेगी कि भाई असर के पहले की चार का सुनत है असर के पहले की चार का सुनत मुझे नहीं छोड़नी या फौरन फजाई सामने आ जाएगी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कि दुआ मांगी कि जो आदमी भाई बैठ जाओ बेटा पानी के साथ थोड़ा जगह कर दो थोड़ा जगह थोड़ी जगह करें भाई इधर आ जाओ इस तरफ आ जाओ आप भाई इधर को तवज्जो हो जाओ आदमी नमाज का नमाज का एहतमाम जिंदगी के अंदर आएगा फिर वो नमाज अल्लाह के खजाने से लेने वाली बनेगी के फजाइल के जरिए कि आदमी नवाबिल नहीं छोड़ेगा अल्लाह के नबी ने मेरे लिए दुआ मांगी है अल्लाह रहम पर मैं उस बंदे के लिए जो सबसे पहले चादर का इस्तेमाल पढ़े कसर के पहले की तो सुनत तो नहीं छूटेगी आदमी के अंदर एहतमाम आएगा तकबीर ओला का एहतमाम आएगा आदमी तकबीर ओला की पाबंदी करेगा नमाज का एहतमाम आएगा और नमाज की मेहनत में आदमी लगेगा कि अंदर से ईमान की मेहनत में अंदर दिल जलेगा कि पहली सब पे सौ वाले के सौ वाले के सौ वाले के हजार वाले के और वही मस्जिद में पहली सब पहली सब भी पूरी नहीं है तो आदमी के अंदर जो दिल जलेगा और फिर आदमी नमाज की मेहनत में लगेगा नमाज की मेहनत तो- नमाज की जिंदा करने की मेहनत के अंदर लगेगा तो ईमान उसको इस मेहनत पे डालेगा और एक वक्त ऐसा आ जाएगा इंशाला कि सौ फीसद नमाज वजूद में आ जाएगी हाँ ये वो दिन दूर नहीं है थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है माशाला कनेक्शन हो गया है कनेक्शन लग गया है अब हमें इस पर मेहनत पहना कि आपकी काम पहली मेहनत के, नम, के जो है वो हम जो मन की मेहनत को बढ़ावे हाँ और नमाज को तो अपनी सही करे अच्छी अच्छी नमाज करे नमाज का जाहिर भी बना नमाज का बातिन भी नमाज नमाज में खुशो खुशो पैदा करे हाँ और फिर ये नमाज को सही करे कि सीखे कि जिसकी नमाज सही उसकी जिंदगी सही है वहाँ ईमान की मेहनत शुरू हो रही है और दूसरे अपने अमल अमल के बनाने की मेहनत शुरू हो रही है तो अमल अमल में नमाज को पहले बनाना है जब पहले नमाज को बनाना नमाज का जाहिर नमाज का बातिन अच्छी तरह वजू करना वजू में सुन्नतें लाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अमल के अंदर के ईमान का जूज है ये अमल पे जान पैदा करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अल्लाह अल्लाह के नबी सलाम का तरीका कि भाई नमाज में सुन्नतें क्या पहले वजू करने में बताई क्या वजू की सुन्नतें लानी है कि वजू की सत्रह सुन्नतें क्या सुन्नत के मुताबिक वजू जानदार बनेगा कि नबी सलाम की सुन्नत है फिर नमाज की इक्यावन सुन्नत है हाथ उठाने की सुन्नत है हाथ बांधने की सुन्नत है रुकू की सुन्नत है सत्य की सुन्नत है इक्यावन सुन्नतें हैं ये हमें नमाज में लाना है फिर ये नमाज हमारी जानदार बनेगी कि इसमें सुन्नतें लाना और नमाज में सुन्नतें आएगी ना तो इनशाला जिंदगी में सुन्नतें आएगी हाँ सुन्नतों वाली जिंदगी सुन्नतों वाली जिंदगी यानी बरकतों वाली जिंदगी तो बरकतों वाली जिंदगी आदमी बनेगी सुन्नत जिंदगी में आएगी क्योंकि सुन्नत आदमी कोशिश करेगा चार किस्म की सुन्नतें हैं कि नमाज के जरिए आदमी आदत की सुन्नतें आदत की सुन्नतों में आदमी जितने आदत के काम है खाना पीना सोना रहन सहन ये सारे आदत के काम है ये सारे आदत के काम है सुन्नत आएगी हाँ ईमान की मेहनत रोशनी डालेगी मोहम्मद रसूलुल्लाह ये भी ईमान है कि आदमी इस पर जो आदमी तो रोशनी उस पर आदमी के पड़ेगी सुन्नतों का आत्मा कपड़ा पहनेंगे ना तो कपड़ा पहनते वक्त ये बात पहले दिल में आएगी कि कुर्ता पहले पहनना चाहिए ये सुन्नत है घर में दाखिल होंगे घर में दाखिल होते सलाम करना चाहिए मस्जिद में दाखिल होंगे मस्जिद में दाखिल होने के लिए या मस्जिद में दाखिल होने की पांच सुन्नतें हाँ ये है सुन्नतों का रंग चढ़ेगा नमाज के जरिए ऐसे लिए दो बातें सीखने में दो बातें पैदा करनी है एक तो इल्म को सीखना क्या सीखना एक तो इल्म को हाँ इल्म हासिल करें जरूरत का इल्म हर एक आदमी सीखे फराइज वाजिबात सुन्नतें मुस्तहबात इसका इल्म आदमी में जो चीज फर्ज है उसका इल्म भी फर्ज है कि जो चीज वाजिब है उसका इम भी उसका सीखना भी क्या है हाँ वाजिब है तो उसको जो वो सीखे इम सीखना है कि आदमी उसको जो सीखे इससे जहालत दूर होगी और जहालत दूर होगी तो आदमी का रुख सही पड़ेगा कि हर चाल ईमान से लेकर इबादत से लेकर माशरत मामला ये सारी चीजें सीखने की है ये सीखना इसी को इल्म कहते हैं ये सीखना इसको क्या कहते हैं इल्म कहते हैं इसलिए लगभग ने सीखने को कहा फालम किसी को पहले ईमान को सीखो फिर अपनी नमाज को बनाओ अच्छी नमाज को बनाओ नमाज को सीखो फिर जिंदगी सीखने को कहा हलाल हराम सारी चीजें और फिर इसके साथ इस्तेदार पैदा करना ध्यान इल्म तो है लेकिन ध्यान नहीं है इल्म तो है लेकिन क्या है ध्यान नहीं है कि अमल को जानदार बनाने के लिए ध्यान है नमाज को जानदार बनाने के लिए अल्लाह वाला ध्यान है इससे इसको इसके वो कैसे पैदा होगा कि जिक्र के जरिए दिन भर के अंदर पंद्रह बीस मिनट पारिक करके तस्वीर ध्यान से पढ़ो इसे जिक्र इसे इस्तेदार पैदा होगा हाँ सुहान अल्लाह अलहमदुल्ला अल्लाह अकबर जो फजाइल है उस फजाइल के इस्तेदार के साथ को तो तस्वीर पढ़नी है गुरु शरीफ ध्यान से पढ़ो ताकि नबी से मोहब्बत हो इस्तीफार कसरत से करो ताकि अल्लाह से रबता मजबूत हो जाए कि अल्लाह माफ करने वाले अल्लाह दरगुजर करने वाले और अल्लाह पाक को इस्तीफार बहुत पसंद है हाँ फिर जिक्र कुरान की तिलावत है कुरान की तिलावत का अहतमाम कि आदमी कुरान का रोजाना अखबार को और दूसरे मोबाइल को और दूसरी चीजों को जो वक्त देता है कुरान की तिलावत को वक्त दे एक पारा दो पारे तीन पारे आगे बढ़े मंजिल मंजिल तक पहुंचे हमारे अकाबरीन तो दस दस पारे पढ़ते थे बाद अकाबरीन पूरा कुरान पढ़ते थे इमाम शाफी मदीना मुनवरा पहुंचे मक्का मुकरमा से सोलह दिन में पहुंचे सोलह कुरान पूरे किए रोज का एक कुरान कुरान से लगाव पैदा हो जाए कुरान से आदमी का लगाव पैदा कुरान की फहम आदमी को मिले कुरान क्या कहता है वो बात आदमी समझे तो कुरान के तीन हक है तिलावत करना कुरान पर अमल करना और कुरान को लेके चलना फिरना अच्छा, कुरान की तिलावत कहता हूँ घर में इसका माहौल बनाए अपने घर में हाफिज बनाए अपने घर में आलिम बनाए चहन में सीखने वाले हुफाज अपने घरों में पैदा होने चाहिए पैदा हो ये पढ़े मदरसे में हाँ दूसरी तालीम से इनकार नहीं है लेकिन ये एक हाफिज के घर के दस ऐसे आदमी जिसपे जहन्नम बाजी हो चुकी है उसको जन्नत पे ले जाएगा एक हाफिज एक पुराने हाफिज हाँ घर में घर में हाफिज होने चाहिए ये घर में इसका एहतमाम होना चाहिए हमारे बच्चे कुरान शरीफ की तिलावत करें हमारे बच्चे भी पढ़ाए एहतमाम करें एक माहौल घर के अंदर बनाना चाहिए और बड़ी बड़ी सूत्र याद करनी चाहिए सूर्य यासीन याद होनी चाहिए सूर्य इस्लाम सद्दा सूर्य मुल्क रात को सोने से पहले पहले पढ़नी चाहिए पांच मिनट लगती है कितनी देर पांच मिनट खाली आदमी मोबाइल खोलता है बंद करता है दस मिनट हो जाती है और देखता है तो एक घंटा चला जाता है और सूर्य का अल इस्लामी सत्ता सोने से पहले पहले क्या फजीलत है ओ हो ऐसी जबरदस्त फजीलत है जो आदमी पाबंदी से ये दोनों सूरतों की तिलावत रात पे करता होगा कि सोने से पहले पहले पढ़ता होगा ये दोनों सूरतें कबर पे जाने के बाद ये सूरतें इसको घेर लेगी अजाबरूप बन जाएगी ये दोनों सूरतें कबर में मुझे और आपको जाना है अल्लाह आसान फरमा है चढ़ाई का घर है वहशत का घर है कीड़े मकोड़े कोई साथ आने वाला नहीं कोई साथ देने वाला नहीं तने तना जाना है और फिर वो फरिश्ते आएंगे सवाल जवाब के क्या बनेगा हाँ, हाँ। ये दो सूरतें घेर लेती है और जब वो फरिश्ते सवाल करने के लिए आते हैं उनसे कहती है जरा दूर से पूछो कि वो दूर से सवाल करते हैं गरीब आने और फिर ये उसको कहती है तो घबरा मत जब तक उसको जन्नत में नहीं दाखिल करेंगे वहां तक हम चैन से नहीं बैठेंगे अल्लाह को टॉपिक देते हैं कि जो आदमी पाबंदी से पढ़ता है ना अल्लाह पाक दीन पर अमल करने की जहन्नम से बचने वाले अमल की जन्नत पे जाने वाले अमल की टॉपिक दे देते हैं तो जो हदीस के फजाइल है ना वो तो फजाइल का मतलब यही है टॉपिक मिल जाना आदमी किसी अमल को मजबूती से कर ले तो अल्लाह पाक टॉपिक दे देते हैं टॉपिक मिल जाती है उसको हाँ वो उस अमल पे नहीं रहता पाबंद बन जाता है वो तो आदमी तिलावत करे इसका अहतमाम करे सूर्य यासिर रोजाना पड़े जुमा के दिन सूर्य के हक पड़े जुमेरात की रात को हाँ जुबेरात की रात उसकी तिलावत करें उसको सूर्य दुकान है इसको जरूर पढ़े रात के अंदर तो ये बड़ी बड़ी सूरतें आदमी को याद होनी चाहिए कुरान शरीफ की ऐसे मसरूम दुआएं हैं कि हमारी हिफाजत के लिए एक एक दुआ नबी दुआ में भी नबी है जो दुआ मांगी ऐसी दुआ कोई नहीं मांग सकता दुआ में भी नबी ऐसी दुआएं मांगी तो ये मसरूम दुआएं इसका अहतमाम एक दुआ है आदमी मांगे कि दुआ मांगने में किसी चीज की जरूरत नहीं चलते फिरते मांग सकता है आदमी अल्लाह से रास्ता करे अल्लाह भूल हो गई अल्लाह से मांगे अल्लाह भूल हो गई रास्ता चलता था बंद नजर हो गई माफ कर दे फौरन माफ देर नहीं करनी चाहिए कि भाई वजू बनाने जाओ अच्छी बात है वजू बनाए दो रकात नमाज पढ़े अच्छी बात है लेकिन दुआ के लिए कि तोबा के लिए तो दो रकात तोबा आदमी करे लेकिन दुआ के लिए आसान है कि कहीं भी मांग सकता है किसी भी वक्त मांगता है अल्लाह पकते भाई करीब मुझे वो मेरे बंदे जब पुकारता है मैं सुनता हूँ तेरी मांग दुआ मांगने से अल्लाह पाक खुश होते हैं बाकी कर रहे और अल्लाह पाक कहते हैं जो मुझसे नहीं मांगता मुतकबिर है सैद खरून जहन्नम दाखिल उसको मैं जहन्नम में दाखिल करूंगा मुझसे नहीं मांगता उसकी जरूरत भी मुझसे नहीं मांगता कि आदमी को मांगना चाहिए तो अल्लाह से अल्लाह से इस्तेदार पैदा होता है ध्यान पैदा होता है हाँ छोटी चीज बड़ी चीज हर नमाज के बाद दुआ कबूल होती है आदमी मांगे अपने मसलों को रखे और फिर मांगे कोई भी मसला आ गया अल्लाह से कहे लोगों से नहीं कहना आगे जब आदमी अल्लाह से कहना करेगा तो फिर अल्लाह निकाल देंगे हाँ और अल्लाह कर देंगे दुआ कबूल होती है पक्की बात है हाँ दुआ कबूल होती है पक्की बात है हाँ वो ठीक है पक्की तौर पर अल्लाह पाक वही चीज दे देते या नहीं हो तो उसके बदले में देर से देते या फिर उसके बदले में तकलीफ परेशानी हटा देते या उसके लिए मुनासिब नहीं होता हाँ क्या भाई गंजन ने नाखून मांगे मुनासिब नहीं है इसको देना आदमी कहता भाई ये इतने दे दे इतने दे दे भाई मुनासिब नहीं है कि पता नहीं आएगा तो छोड़ देगा होता है ना कि कुछ नहीं था तो आदमी हो रात को हाजी साहब रात को डेढ़ बजे आते थे दो बजे मस्जिद में आते थे कि भाई क्या बात थी अब हाजी हमने बिल्कुल छोड़ दिया भजन भी गायब अरे भाई क्या बात क्या मसला आया अरे भाई पहले मसलो हल से ही गयो हाँ अल्लाह ने दे दिया तो मसला हल हो गया तो मस्जिद से निकट गया तो अल्लाह हकीम हकीम है कि क्या देना वो जानता है तो वो देता है वो दुआ कबूल करनी नहीं करनी पड़ता दुआ कबूल है क्या उसके बदले में देना और फिर हाथी से बात में है कि कल कयामत के दिन अल्लाह अब्बा उसकी दुआओं को पेश करेंगे कि हमारे बंदे उस वक्त तो वो तमन्ना <coughs> कहेगा कि काश दुनिया में एक भी दुआ कबूल न हुई होती ऐसा मुझे यहाँ मिला तो दुआ का अहतमाम इससे आदमी के अंदर इस्तेदार पैदा होता है ध्यान पैदा होता है इल्म और जिक्र ये ध्यान पैदा होता है इल्म से जहालत दूर होती है ये दोनों चीजें इसको लेकर आदमी चलना इस पर आदमी जो वो मेहनत करे और फिर इसके बाद आगे ईमान पर मेहनत करते करते अमल को संवारते संवारते अपनी माशरत को भी अच्छी बनाए अपना रहन सहन रात को जल्दी सोना है हाँ इस्लामी कल्चर इस्लामी कल्चर रात को जल्दी सोना देर नहीं करनी ग्यारह बारह बजे तक कि नहीं जल्दी ईशा के बाद कोई काम नहीं है ईशा के बाद जल्दी सो जाओ सुबह जल्दी उठो अपना वजाकता कि मुसलमान का वजाकता कैसा होता है मुसलमान का लिबास कैसा होता है मुसलमान की शादी कैसी होती है मुसलमान के मामला कैसे होते हैं मुसलमान घर में कैसे रहता है कि माशरत कैसी होती है अच्छी होती है ये घर में दाखिल होते अल्लाह के नबी जब घर में दाखिल होते के मुतारत खुश हो जाती ये ये माशरत हमें ऐसी बनानी है इस्लामी कल्चर कि घर में वक्त देना है बीवी बच्चों को बीवी को वक्त देना है बच्चों को वक्त देना है कि माशरत बनाए कि माशरत उनके साथ में अच्छी माशरत बाशिर होना भी मारूफ तो उनके साथ में अच्छी अच्छी माशरत हम गुजारे माशा तो उनके साथ में अच्छी होनी चाहिए बीबी का काम की तारीफ करे बीबी को वक्त दे वक्तन फवक्तन हदिया दे आदमी शादी के पहले तो बहुत हदिया देता है हाँ। कि नहीं शादी के बाद असल शादी के बाद है शादी पहले नहीं कि शादी के बाद मोहब्बत बढ़नी चाहिए उसके कामकाज की तारीफ करो उसको वक्त दो हाँ उसके साथ दिलजोई करो हदीसा बाद में ऐसे ऐसे अल्फाज है आप क्या अल्लाह के नबी सामने घर अजवाज मुतार ऐसा मामला क्या ऐसे अजवाज की जिंदगी आपने गुजारी हाँ कभी आप लुकमा के खाना खिलाते थे तो सुंदर तरीका है तो बीवी के साथ में बैठे हो तो कभी बीवी को बल्कि घर में दाखिल होते मुस्कुराओ से बाग में आता है कि जब बंदा घर में दाखिल होता है और बीवी को देखकर मुस्कुराता है और बीवी उसको देखकर मुस्कुराती है अल्लाह पाक दोनों को देखकर मुस्कुराते और अपनी रहमत दोनों पर उतरते ये अजवादी अजवादी जिंदगी है ऐसी जिंदगी हमारी होनी चाहिए ये नहीं कि जल तू जलाल तू साहिब कमाल तो आई बला को टाल तू कि पता नहीं कहा से घर में मुसीबत आ गई क्या होगा हाँ नहीं घर में दाखिल होते कि घर का माहौल हाँ और बच्चे के बच्चे जब जवान हो जाए ना बाप के दोस्त बन जाते हाँ कि बेटा जवान हो गया अब आपका मुश्किल बन गया अब उसको उसको दोस्तों के सामने झिड़को मत उसका अपना मुश्किल बनाओ उसको अपने कामकाज में आगे बढ़ाओ उसको जिम्मेदारी दो बड़ा हो गया है कि माँ घर के अंदर बीवी के साथ ने ये माहौल बनाया तो बीवी माहौल बनाएगी आपका साथ देगी घर के अंदर मास्टर जब बच्ची बनती है ना तो फिर बीवी और हमारा कल्चर ये है जो बीवी आती है ना वो ये तय करके आती है कि इसके साथ जिंदगी गुजारनी है कि इसी घर से जनाजा निकलेगा मेरा वो तलाक लेने के लिए नहीं आती वो झगड़ने के लिए नहीं आती हाँ तो इसको परेशान करना है वो तो हम करते हैं कि शुरुआत हमारी तरफ से होती है कि फिर वो तो बाद में वो तो जागती है कि सौ सोनार की एक लोहार की वो तो फिर आखिर में वो जागती है हाँ, हाँ। जब कुछ देर हमारी ताखिर हमारी तरफ से कि सही जिंदगी हमें घरों के अंदर करनी है कि हमारी अजवाजी जिंदगी अच्छी बने कि वो तो तय करके आई कि जब ये अजवाजी जिंदगी एक बुजुर्ग के गला वाले थे वो कहते थे कि हम जब पुराने घर में रहते थे वाली साहब का इंतकाल हो गया तो वालदा हम वालदा उसी घर में थी अल्लाह ने हमें अच्छा मकान दिया बड़ा मकान हमने बनाया तो वालदा उस पुराने मकान में आती नहीं थी तो हम गए हमने कहा कि अम्मी जान चलो उस मकान में उस मकान के नहीं बेटा ये सही है खैर एक मरतबा वो तय करके आज तो अम्मी को लेके जाना है तो दोनों मियाँ भी गए बहुत मल्लू समाज थी खुजामत की और कहते हैं कि नहीं अम्मी अब तो अपने इस घर को छोड़ेंगे नहीं आपको लेके जाएंगे तो उस माँ ने एक जवाब एक जुमले में जवाब दिया माँ ने कहा कि बेटा तेरे बाप का जनाजा इसी घर से गया है तो तेरे बाप का जनाजा इसी घर से गया है मेरा जनाजा भी इसी घर से चमन का रंग सरासर एक खिजा तूने बदला हमने नशा के गुल छोड़ी ना हमने आशिया बदला हाँ तो वो तो दे करके आई है अब हमारी जिम्मे है कि उसको इस अजवादी जिंदगी के जरिए घर के अंदर अमल दावत के जरिए और इन फिक्रों में ईमान और अमल की फिक्रों में इसके रंग के अंदर रंगना हाँ, के घराना पूरा इसके जिम्मे है पूरी माशरत इसके जिम्मे है बच्चे इसके जिम्मे है जो उसको इस अमाल दावत के अंदर रंगना कि हमारी एक मेहनत है कि अमाल के घर की तारीख के जरिए हफ्तावारी के जरिए वक्ता को वक्तन से रोजा और असरा और चिल्ले के जरिए घर का एक माहौल बनाना ये फिर ये दीनदार बनेगी तो ये दीनदार बनेगी पूरे घराने को दीनदार बनाएगी हाँ क्या औरतें पक्की होती है कोई औरत आपको नहीं मिलेगी मुर्तद हो गई हाँ एक औरत नहीं मिलेगी तारीख में मर्द मिलेंगे बहुत सारे मुर्तद हो गए लेकिन एक औरत नहीं मिलेगी पक्की होती है वो अपने काम में इस्तेकामत होती है सबर होती है किसी काम को मजबूती से लेती है हाँ और पूरा घर घर का पूरा कंट्रोल उसके कब्जे में अगर वो दीनदार बनी ना तो घर में उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी दीनदार थी कि बादशाह तो उन पर असर नहीं कर पाई कि बाप भी बादशाह था भाई भी बादशाह था लेकिन घराना को घराने को दीनदार बना दिया और जरा भी हालात से मुतासर नहीं हुई इन बेटों पे बादशाह का बिल्कुल असर नहीं था घर के अंदर दाखिल हुए उमर इबन अब्दुल अजीज तो बेटियां हाथ मुंह पे हाथ रख के बात कर रही थी उमर इबन अब्दुल अजीज ने कहा क्या बात है कि फातमा क्या बात है कि बेटियां मुंह पे हाथ रख के बात कर रही है बीबी ने कहा हाँ कि आज सालन में आज दोपहर में खाने में सालन नहीं था और सालन की जगह बच्चों ने कच्ची प्याज खाई है कि जिसकी बिना पर मुझे बदबू आ रही है इसलिए हाथ रखा हुआ है और जब दिनदार बनती है घराने को घराने को बदल देती है हाँ पूरा घराना कि सादगी अंदर आती है सादगी घरों में आती है हाँ हाँ ये सारी चीजों में सादगी आ जाती है हाया आती है पाक दमनी आती है उमर मैंने अब्दुल अजीज अंदर के दाखिल हुए बेटी को कहा बेटी से कुछ आवाज लगाई बेटी नहीं आई अहलिया से कहा क्या बात है बेटी को बुलाता हूँ नहीं आती कहा देखो उसके पास इधर फटी हुई है वो कमरे के अंदर है वो अपनी इजार को सी रही है कि बादशाह की बेटी है क्या औरत दीनदार है कि ऐसे हालात में भी घराने को बना दिया और ऐसे हालात से भी गुजार दिया हाँ कि जब वो दीनदार बनती है कि वो एक एक की फिक्र करती है बेटे ने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी बेटी बेटी एहतमाम के साथ बुरखा पहनती है कि नहीं पहनती हाँ वो फिर फोन करेगी आपका घसका देने आज खाना आज खाना रात को रात को खाएंगे कि चाहे साले का प्रोग्राम हो भाई के बाप प्रोग्राम हो लेकिन वो कि नहीं आज का का दिन है महीने के आपके तीन दिन है कि तीन दिन आपको लगाने हैं और सुबह होते वो कहती है देखो हलाल लाना हाँ अगर दीनदार है अगर बेदीन है तो क्या कहेगी फ्रिज लाना है फुलानी चीज लानी है फुलाने तकाजे लिस्ट पूरा दे देगी इतने तकाते हैं हाँ आदमी सर खुजलते ही रहेगा और दीनदार है तो एक जुमला कहेगी हलाल लाना भूखे रहेंगे हाँ पेट में हराम नहीं डालेंगे कमाई के जिसम पर जो कपड़े पे टिगड़े चलेंगे हाँ ईद ईद में कपड़े नहीं होंगे चलेंगे उमर इबन अब्दुल्ला की ईद आई के बच्चे बिल बिल रहे कि जब कहा उन्होंने तो नहीं नहीं हो सका कपड़े नहीं हो, तो नहीं हो पाए हाँ वही कपड़े पहन लिए और उसी से ईद मनवा ली जब वो चला लिया तो ऐसा घर का माहौल जब औरत माशरत अच्छी बनती है औरतों के जरिए औरतें दीनदार बनती है ना पूरी माशरत अच्छी बनती है और जिसकी माशरत बनती है ना फिर उसके मामला अच्छे बनते हैं मामला जो बिगड़ते हैं ना आ, क्या जितनी आवक उससे जावक ज्यादा हो जाती है इसमें मामला बिगड़ते हैं हाँ बाहर जाके होटलों में खाने का रिवाज पड़ता है और जो है वो दूसरी दूसरी चीजों का रिवाज पड़ता है और शादियों में बेताता पैसे खर्चे खर्च करने का कि सादगी चली गई बेहयाई आ गई फैशन आ गई गलत चीजें आ गई इससे मामला बिगड़ते हैं क्या तो करूच पड़े आता उत उत उठता है अट्टा ने कितनी तो अट्टा ने खवड़ा पड़े या मामला में बिगड़ पैदा हो जाता है मामला तो आदमी के बिगड़ जाते हैं फिर आदमी के अखलाक बिगड़ते हैं नहीं इन चीजों को लाने के लिए अल्लाह तबारक वाली ने जो दूसरी जिम्मेदारी हमें दी तीसरी जिम्मेदारी दी ये दूसरी जिम्मेदारी औरतों की है वो अंतों को वालिकुम नारा इनको दीनदार घराने को दीनदार बनाना इस तरतीब से माशरत को हाँ और तीसरी जिम्मेदारी कि पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के लोग दीनदार बने कि ईमान सबका बने और सबके अंदर सब दीन के साथ जिंदगी गुजारने वाले बने बरकतों वाली जिंदगी गुजारे हमारी ये मेहनत का खुलासा यही है हाँ की मेहनत चलत फिर और इस मेहनत के जरिए दोनों चीजें वजूद में आती है पूरा दिन भी जिंदा होता है और दिन की मेहनत भी जिंदा होती है हाँ कि दिन भी जिंदा होता है और इस मेहनत के जरिए लोगों की जिंदगियों में दिन भी जिंदा होता है एक अच्छा अजीब निजाम बनाया कि आदमी इस रास्ते में निकले चार चार महीने लगाए और चार महीने लगाकर अपनी जिंदगी अपने ईमान को बनाए ईमान बनता है अमल अच्छे बनते हैं नमाजें जानदार बनती है माशरत मामला अच्छे बनते हैं शरीफ पर्दा आता है आदमी के अंदर वक्त लगाने के बाद आदमी अपनी सारी से पर्दा करता है हाँ खालाजात मामूजात फूफीजात बहनों से पर्दा करता है शनि पर्दा वक्त लगाने से अंदर की माया मजबूत बनती है माहौल अच्छा बनता है फिर बीस बीस साल की आदमी जकत निकालता है हाँ हक अदा करता है <clears throat> कि भाई दुकान तो दादा नहीं थी मेरे मेरे अब्बा की थी और मेरे अब्बा के तो तीन बेटे थे बच्चे कहते हैं कि अब्बा आपकी दुकान आपकी दुकान नहीं है तो दादा की थी और आपके दो भाई है और तीन बहने हैं और आपने दुकान पे कब्जा कर लिया है पच्चीस साल हो गए पच्चीस साल से आप उनका हक मार रहे हैं भाइयों को आपने हक नहीं दिया अब वो चार महीने की बरकत से वो वो जो है वो दुकान की करोड़ों की है कि कोई बात नहीं करोड़ों रुपए हो अब, अबजों रुपए हो नहीं मुझे आखिरत में आखिरत अपनी सवार बनानी है इनको इनका हक देना है वो चार महीने लगने के बाद जिंदगी सी होती है कि तो गलत काम करने वालों ने तोबा कर ली फिल्मी स्टारों ने तोबा कर ली गलत नाचने वाली गाने वाली औरतों ने तोबा कर ली शराबी कबाबी ने तोबा कर ली एक राह है एक मेहनत है और दुनिया में एक मेहनत हो रही है और अल्लाह का फजल है पूरी दुनिया के अंदर मेहनत हो रही है काम चल गया है कोई नई मेहनत की जरूरत नहीं है कोई नए प्रोग्राम के लाने की जरूरत नहीं है जो गाड़ी चल रही है उस गाड़ी में सवार करना है कि आदमी इस गाड़ी में अपने आप को सवार कर ले उस गाड़ी में सवार हो जाए कि चलो नहीं माशाला हमारे अभी मेहनत हो रही है मस्जिद बार जमात है माशाला मेहनत हो रही है लेकिन अभी काम बहुत बाकी है अभी ऐसा लोग पाती हमारे मोहल्लों में अभी सौ फीसद कोई मस्जिद ऐसी नहीं है सौ फीसद नमाजी हो कि कोई मस्जिद ऐसी नहीं है कि सौ फीसद नमाजी हो सौ फीसद माशरत मामला तो बहुत दूर की बात रही कि अभी तो नमाज नहीं है अभी ऐसे ऐसे अफराध मिलेंगे अभी हज का मौसम है ऐसे ऐसे लोग हज में आते लब्बे की याद नहीं है कलमा याद नहीं है वजू बनाने का तरीका याद नहीं है कि हजूर की उम्मत है अल्लाह के नबी ने इसके पीछे अपना सब कुछ लगा दिया साहबा ने अपना सब कुछ लगाया फिर उस उम्मत के पीछे अपनी जान अपना मान सब कुछ लगाया कुर्बान किया और उम्मत को हरा भरा कर दिया उम्मत को कि किसको में कि आप कौन सी सजा छोड़ गए कि उम्मत हरी भरी थी क्या मुझे और आपको ये मेहनत मुझे और आपको ये मेहनत मिली है इसलिए बुजुर्गो दोस्तों बहुत देर हो गई बहुत ताखिर हो गई अल्लाह में माँ फरमावे अल्लाह में माँ फरमा सच्ची तोबा करे और दुनिया मेहनत की जगह बनाई है जिम्मेदारी पूरा करने की जगह बनाई है ये तीनों जिम्मेदारियों को हमें पूरा करना है इसके लिए क्या करना और फैसला करना कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है अभी भी कुछ गया नहीं है शैतान क्या कहता है बात तो सही है बात तो सही है फैसला करना चाहिए और बाकी में अल्लाह के रास्ते में जाना चाहिए चार चार महीने लगाने चाहिए लेकिन शैतान क्या कहता है पहला हमला कहता है अभी नहीं बाद में हम आपसे यही कहते हैं कि यहाँ इस वक्त बैठे हो बात सुनिए बात समझ में आई अब भी फैसला करना है कि नकद जाना है हाँ शैतान कहेगा दुकान उजड़ेगी घर उजड़ेगा उसे कहो हाँ उजाड़ना है उजड़ेगा नहीं <coughs> आज तक कोई आपकी बर्बाद नहीं हुआ तब तबलीग में लगने के बाद कि नकद जाने वाला आप की मेहनत है गैपी निजाम है गैपी निजाम ऐसा गैपी निजाम है कि आदमी करेगा राहत और बरकतों के रास्ते हैं कि बरकतें और राहतें जो है आदमी को जो वो मिलेगी अजीब निज़ाम है आज देखो दुनिया में मेहनत करने वाला कोई परेशान नहीं है कोई तकलीफें नहीं कोई बलाएं मुसीबत उसको घेरते नहीं अल्लाह आसान कर देते हैं हाँ ऐसे लिए अपने आप को पेश करना है नकद पेश करो अल्लाह ताला ने जब भेजा ही है में अल्लाह ने ही भेजा है और अल्लाह ने तोफिक दी है और दिन में अल्लाह ने ही बात डाली है तो अब फैसला करना चाहिए कब तक कब तक हम ताकिद करते रहेंगे समझो आदमी कहता है एक महीने के बाद दो महीने अरे भाई कितने साल से इस्तीमा हो रहा है कितने इस्तीमा चले गए कि चार महीने अभी तक नहीं लगे और चार महीने खाली लगेंगे फिर लगाना चाहिए इसको तो बार बार लगाना है लेकिन आदमी विदा करे पहली बार इतना तो इसलिए पूरा मजमा पहले तो नियत करो कि माशाल्लाह जैसे जमकर बात सुनी है और जमकर सारे लोग बैठे हैं ऐसे पूरा मजमा नियत करो कि जब तक पूरी तश्किल नहीं होगी वहां तक जमकर बैठेंगे अरे भाई बैठोगे अरे बैठोगे अल्लाह आपको जजाय खैर दे अब जो है सारे बैठे रहो दिल दिल में दुआएं मांगो अब जिसके दिल में आ जाए वो हिम्मत करके खड़ा होना शुरू करो मशाला आप हिम्मत करके खड़ो के लिखाना शुरू करो इनशाला चार महीने के लिए मैं